जहान ने गर्दन जरा आगे करके देखा और मुस्कुराया और तुम कह रही थी कि यह अच्छा नहीं है हया ने रुमाल की सिमत देखा जिसके एन वस्त्र में एक मोती चमक रहा था सियाह रंग का मोती आयशे के मोती सफेद निकलते हैं सफेद होता है पाकिजगी मासूमियत नेकी की अलामत मगर मेरा मोती सियाह रंग का निकला बहुत से सफेद मोतियों में किसी अगली डकलिंग की तरह वो उदासी से मोती को देखते हुए कह रही थी जहान ने समझकर असबात में सर हिलाया वाकई स्याह तो बुराई का रंग होता है जादू की सबसे बुरी किस्म स्याह जादू कहलाती है गुनाहों से बड़ा दिल स्याह दिल होता है गुनाहगारों के चेहरे सियाह होंगे रोज क्यामत उसकी बात पे हया का चेहरा मजीद बुझ गया मगर मेजर अहमद की बात अभी खत्म नहीं हुई थी और तुमने इससे यह अखज किया कि सियाह एक बुरा रंग है हम्म उसने नफी में सर हिलाया सियाह वो रंग है जो धनक के सारे रंग अपने अंदर जज्ब कर लेता है ये एक डार्क रंग है और डार्क बुरे को नहीं डीप को कहते हैं यानी गहरा सारे रंग उस पे मतफन है और वो उनको किसी राज की तरह छुपाए रखता है वो जो गहरा होता है हाँ वो स्याह होता है ठीक है स्याह रात में गुनाह किए जाते हैं मगर बेरिया इबादत भी रात की सियाही में ही की जाती है काला जादू काला इसीलिए कहलाता है कि ये सफेद जादू से गहरा होता है ये गहराई का रंग है देर पा होने का रंग इसीलिए काबे का गलाफ स्याह होता है आसमान का रंग भी तो स्याह है बारिश के कतरे अपने अंदर सुमोए बादल भी तो काले होते हैं कुरान के लफ्ज भी तो अमूमन सियाह रोशनाई में लिखे जाते हैं और वो सांस लेने को रुका और तुम्हारा बुरका भी तो स्याह है ना उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए चेहरे पे एक सुकून सा आ ठहरा उसे जैसे मेजर अहमद फिर से मिल गया था उसने मुट्ठी बंद कर दी रुमाल हाथ के किनारों से झलकने लगा था और क्या स्याह रात में की गई नेकियां स्याह बुराइयों को धो डालती हैं तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होता होता होगा मगर वो वीडियो अगर वो किसी के पास हुई तो उसकी आवाज में कर्ब डराया जहान ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा क्या वो किसी के पास है हया नहीं मैं तो यूं ही कह रही थी वो कहकर पछताई अब उसे जल्दी से बात बदलनी थी अगर वो किसी के पास है तो तुम मुझे बता सकती हो मैं तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी जहान जब मैंने रेस्टोरेंट में गुलदान तोड़कर फेंका था या जब मैंने तुम्हारे ऊपर जिंजर ब्रेड का टुकड़ा फेंका था तेजी से बात पलटने की कोशिश में वो बिना सोचे समझे बोली थी वो जो रवानी से कुछ कह रहा था उसके लब ठहरे आंखों में जरा सी बेयकीनी उतरी मगर फिर वो उसी रवानी से बोला जब तुमने मेरे ऊपर ठंडा स्लश फेंका था वो सांस रोके उन्हीं ठहरी हुई पुतलियों से उसे देखे गई चंद लम्हे सरहदी लकीर के गेट सब कुछ रुक गया और फिर वो दोनों हंस दिए देख लो मुझे भी आता है लोगों से जवाब निकलवाना अल्लाह इन लोगों पर रहम करे वो गर्दन पीछे फेंके हंसती जा रही थी सख्त गर्मी में जैसे किलस से बाहर उतर आई थी जब हंसी रुकी तो उसने मुस्कुराहट बमुश्किल दबाए ध्यान को देखा क्या तुम्हें याद है कि पहली दफा जिंदगी में तुमने केक कब खाया था या पहली दफा तुम कब रोए थे नहीं ना किसी को भी ऐसी बातें याद नहीं होती मुझे भी नहीं याद कि कब पहली दफा मैंने अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ सुना था वो दूर फैले मकई के तारीख खेतों को देखते हुए कह रही थी याद है तो बस इतना कि तुम्हारा जिक्र मेरे साथ हमेशा से था जैसे मेरा साया मेरे साथ है या जैसे मेरी रूह और तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी हया ने महफूज निगाहों से उसे देखा मैंने तो नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है ओके मैंने यकीन कर लिया वो भी जिहान था मगर इतनी आसानी से तो वो नहीं कहने वाली थी वो जो विंड चाइम मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था अभी घर रखा है तुम पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें दूंगी मगर तुमने उस पे लिखा हजरत उमर रजी अल्लाह तु का कॉल पढ़ा वो शख्स जो सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता था मगर घर बनाने के लिए मोहब्बत जरूरी नहीं होती जिहान मोहब्बत तो बाद में भी हो जाती है वफा और कदरदानी ज्यादा अहम होती है फिर वो रुकी और बेसाख्ता उमट कर आती मुस्कुराहट रोक कर बजाहिर संजीदगी से बोली तुमने कदरदानी निभाई वो ऐसे कि तुम मेरी कदर करते हो और जानते हो कि सर्च लाइट लेकर भी ढूंढोगे तो मेरी जैसी बीवी नहीं मिलेगी और मैंने वफा निभाई सो तुम्हें नहीं छोड़ा क्या हुआ जो तुम मेरे जितने गुड लुकिंग नहीं हो क्या हुआ जो तुम एक मुरवत बदलिहाज और बदतमीज इंसान हो मगर हो तो मेरे शोहर ना साथ ही उसने शाने उचकाए जिहान ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया बहुत शुक्रिया हया चंद साते किलस की सरजमीन खामोश रही दरख्त और उनके पत्ते होले होले सांस लेते रहे फिर वो बोला मेरा मसला ये था हया कि मैं हमेशा सोचता था कि इस रिश्ते को अपनाऊं या नहीं मगर बहुत देर से मैं ये समझा हूँ कि ये रिश्ता तो हम बहुत पहले अपना चुके थे बात करने या ना करने की हद से आगे निकल चुकी है अब निभाने का फेज है बस समझने में देर हुई मगर मैं समझ गया हूँ हया के नंगे पैरों पर कुछ रिंगा था उसने जल्दी से पांव झाड़ा कोई कीड़ा था शायद मगर माहौल का तिलसम टूट गया जिहान ने एक घड़ी देखी पौने दो होने को थे अब मुझे जाना है और हया को लगा उसका दिल जोर से समुंदर में धकेल दिया गया है ये दर्द इतना शदीद था कि उसे जिस्मानी लिहाज से भी महसूस हुआ था वो दरख्त के टेक छोड़कर उसकी तरफ मुड़ी जहान प्लीज मत जाओ आंखों में इस्तराब लिए वो इल्तजा करने लगी थी नहीं हया ऐसे मत करो प्लीज मेरे दिल को कुछ हो रहा है मुझे डर लग रहा है तुम मत जाओ हया ये इतना बड़ा मसला नहीं है ये ऊपर सितारा जो है ना उसने आसमान की तरफ इशारा किया मगर हया ने ऊपर नहीं देखा वो उसी मुस्तरब अंदाज में जहान को देख रही थी ये सितारा अपने दाएं जानिब रखकर मैं चलता रहूंगा और एलयू पे पहुंच जाऊंगा ये बहुत सिंपल है हया जहान प्लीज ना जाओ देखो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या पता वो जानते हो वो पहले से तैयार बैठे हो फिर वो कैसे जान सकते हैं जब मैंने या तुमने उनको नहीं बताया तो मगर यहाँ बारूदी सुरंगे हैं वो मसला नहीं है मसला सिर्फ कमांडर होता है और कमांडर शिया है यानी कोई मसला नहीं है शिया उसने हैरत से जहान को देखा ये फिरका वारियत कहां से आ गई देखो शाम के सदर बशारुल असद शिया हैं और पापा सुन्नी हैं किसके पापा अच्छा तैयबुर्दगान अल्लाह ऐसी अकलमंद बीवी हर एक को दे देखो तो यह बुर्दगान सुन्नी है सो जब बॉर्डर का कमांडर सुन्नी होता है तो आप शाम से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं सिक्योरिटी नरम होती है मगर तुर्की से शाम जाने में मसला होगा लेकिन जब कमांडर शिया होता है तो वो आपको शाम जाने देगा मुझे समझ नहीं आई मतलब ये कि अगर शाम से तुर्की जाना है तो तब जाओ जब सुन्नी कमांडर हो और जब तुर्की से शाम जाना हो तो शिया कमांडर के वक्त जाओ मैं इसीलिए इतने दिन ठहरा रहा क्योंकि कमांडर बदलना था चार रोज पहले नया कमांडर आया है दुनिया के हर बॉर्डर पे कमांडर की तब्दीली के घंटे भर में भी उसका नाम वगैरह स्मगलर और जासूसों में फैल जाता है ये वाहिद बॉर्डर है जहाँ पहली बात यही फैलती है कि वो सुन्नी है या शिया ये फिरका वारियत नहीं है ये तो बस स्ट्रेटेजिक है वो उसी तरह फिक्रमंद और परेशान सी उसे देखती रही मैं अगले हफ्ते मंगल के दिन पाकिस्तान आ जाऊंगा मेरे यकीन करो हया ने असबात में सर हिलाया वो उसको रोकना चाहती थी मगर अब यह उसके हाथ से बाहर था अब याद करो आशियाना में मेरा वादा कि हर प्लान मैं डिसाइड करूंगा याद है हम्म उसने गर्दन हिलाई आंसू गले में फंदा डाल रहा था अब मुझसे कुछ वादे करने होंगे तुम्हें वो बहुत गौर से उसे देखता कतियत से कह रहा था मेरे जाने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो पत्थर के हो जाते हैं हया ने फिर असबात में गर्दन को जुम्बिश दी उसकी आंखें भीग रही थीं और मेरे जाने के बाद पूरे पांच मिनट बाद तुम यहां से उठोगी और मुड़े बगैर वापस गाड़ी तक जाओगी क्लियर हाँ ठीक उसकी आवाज रुंधी हुई सी निकली और तीसरी बात इस दरख्त के उस पार यानी सरहद की तरफ तुम नहीं जाओगी बल्कि वापस गाड़ी की जानिब जाओगी हया कुछ भी हो जाए भले कुछ भी हो जाए तुम इस जगह से आगे नहीं जाओगी जिहान उसने कहना चाहा मगर जिहान ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया मैं कुछ नहीं सुनूंगा मैंने कपादोकिया से यहाँ तक तुम्हारी सब बातें मानी अब मेरी ये तीन बातें तुम मानोगी तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगी भले तुम कुछ भी देखो या सुनो मुझे कुछ भी हो जाए मैं मर भी जाऊं गिरफ्तार भी हो जाऊं जो भी हो तुम वापस गाड़ी तक जाओगी बस उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी बमुश्किल वो कह पाई ठीक मगर एक बात मानो मेरी क्या वो जो तुम्हारा नकली दाग साइनाइट वो तो मुझे दे दो मैं इसे यही फेंक दूंगी मगर मैं इस ख्याल के साथ नहीं रह सकती कि तुम अपने मुंह में जहर प्लीज जिहान साथ ही उसने बंद मुट्ठी खोली रुमाल भी खुलता चला गया मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता जहान ने चेहरा जरा दूसरे सेंस किया और उंगली से दांत से कुछ निकाला हया ने आंखें बंद कर ली उसने कोई नोकदार चीज रुमाल पे रखी और रुमाल बंद कर दिया हया ने आंखें खोली और फिर मुट्ठी भींच ली गोल मोती नोकदार चीज वो महसूस कर सकती थी चल लम्हे वो यूं ही उसे देखता रहा रात गुजरती रही तुम्हें पता है हया तुम इन जन्नत के पत्तों में बहुत अच्छी लगती हो वो भीगी आंखों से मुस्कुराई तुम भी मेजर अहमद मैं उसके चेहरे पे उलझन उभरी तुमने कहा था कि जन्नत के पत्ते हर वो चीज होते हैं जो इंसान रुसवा होने के बाद खुद को ढकने और दोबारा इज्जत हासिल करने के लिए ओढ़ता है तो फिर अपनी फैमिली पे लगा दाग धोने के लिए जो यूनिफॉर्म तुमने पहना जो कैप तुमने ली वो सब भी तो जन्नत के पत्तों में ही आता है ना वो हल्के से मुस्कुराया फिर घड़ी देखी और खड़ा हो गया हरे ने उसके जूतों को देखा उसके जूतों का रुख उनका रुख मंगल को आऊंगा मैं जरूर इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले मैंने कहा था किस्मत हरा सकती है मगर मैं गलत था किस्मत इंसान को मार तो सकती है मगर हरा नहीं सकती और फिर वो दरख्त के पीछे चला गया वो मुड़ कर भी ना देख सकी उसने वादा किया था सो वहीं चुपकी बैठी रही अपने दिल की धड़कन अपने हाथों की लर्जिश सब महसूस हो रहा था उसे एक हाथ में पोटली के अंदर मोती की गोलाई और नकली दांत की चुभन और दूसरे में वो चौकी उसका दूसरा हाथ खाली था अल्लाह अल्लाह उसके पैरों तले से जमीन निकल गई डीजे की टूटी अनक वो भी उसके हाथ में थी फिर वो पैर से कीड़ा झाड़ने लगी तब वो कहां गई उसने बदहवासी से हाथ अंधेरी जमीन पे इधर उधर मारा नोकीले छोटे पत्थर घास के सूखे तिनके मिट्टी ऐनक कहीं भी ना थी नहीं प्लीज नहीं उसने अंधों की तरह रुमाल वाली बंद मुट्ठी और दूसरे खुले हाथ से मट्टी को टटोला कुछ भी नहीं था रुमाल पर्स में रखने की गर्ज से उसने पर्स खोला और फिर बस एक नजर देखने के लिए पोटली खोली अंदर स्याह मोती के साथ एक नन्ही सी चीज पड़ी थी एक सुरमई रंग का छोटा सा कंकर जिहान बेयकीनी से उसके लब खुल गए प्रोफेशनलिज्म उसूल उसे उनमें कोई समझौता ना था उसका दिल रखने के लिए उसने हया को ये तासुर दिया कि वो दांत निकाल रहा है मगर अपने फरार का वाहिद रास्ता उसने अपने पास ही रखा था उसने नीचे पड़े उस जैसे हजारों कंकरों में से एक उठाकर रुमाल पे रख दिया था जिहान बहुत तकलीफ से उसने मुड़कर दरख्त की ओर से उस पार देखा पहला वादा छन से टूटा दूर सरहदी बाढ़ तारीकी में डूबी थी इतनी तारीकी कि कुछ दिखाई नहीं देता था उसी पल बिजली जोर की चमकी पल भर को सब रोशन हुआ और तब उसे दिखाई दिया एक हेवला जो टेढ़ी चाल चलता सरहद की तरफ बढ़ रहा था पांच मिनट कब के गुजर चुके थे दूसरा वादा बादलों की गरज में तहलील हो गया था वो दम सादे बिजली चमकने का इंतजार करती अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी मगर अब उसने वो हेवला खो दिया था गुजरते वक्त का एहसास करके वो उठी और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए साथ ही वो झुके हुए जमीन पे हाथ मारकर ऐना ढूंढ रही थी दफतन करीब ही उसका हाथ किसी सख्त शय से टकराया स्ट्रैप लकड़ी उसने वो चीज उठाई टूटी सुर्ख जूती अब ऐनक और दूसरा जूता ढूंढना बेकार था वो सीधी खड़ी हुई ताकि वापस जा सके अब उसे पीछे नहीं देखना था अपने पर्स को पकड़ा ही था कि दूसरे जूते निकाले कि एकदम कहीं से सूरज निकल आया रोशनी आंखें चुंधियाती रोशनी वो तेजी से वापस बैठी काली रात रोशन हो गई थी जल्दी बुझती रोशनी उसने हरासा निगाहों से पलट कर देखा सरहद पे रोशनी के राउंड्स फायर किए जा रहे थे अंधेरे में हर तरफ रोशनी बिखरती मध्यम होती फिर बिखरती सरहदी बाढ़ पे हेवले से भागते दिखाई दे रहे थे उसने जमीन पर पड़े एक बड़े पत्थर को खाली हाथ से सख्ती से थाम लिया दिल धक धक कर रहा था रोशनी फायरिंग गोलियां स्पीकर पे आवाजें वो बिना आवाज के लब हिलाते हुए चिल्लाई जिहान वापस आ जाओ आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे जिसम कपकपा रहा था रोशनी फवारों की सूरत बार बार फूट रही थी उसका दिल चाहा वो भागती हुई सरहद पे चली जाए मगर वो तीसरा वादा वो पैर की जंजीर बन गया वो हर दफा उसे छोड़कर जगह छोड़कर चली आती थी पहली दफा वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी मगर जहान के वो अल्फाज उसे वापस भेज रहे थे हया कुछ भी हो जाए कुछ भी और फिर एकदम जोर से धमाका हुआ पत्थर को पकड़े गठरी की सूरत बैठी हया के बहते आंसू रुक गए उसने साकित निगाहों से सरहद की जानिब से आते धुएं को देखा रोशनी चीखो पुकार सायरन बारूद की खुशबू और फिर धुएं के बादल हर तरफ छाते गए सरहद छुप गई और धुंधली दीवार एक दफा फिर उन दोनों के दरमियान छा गई क्या हुआ था क्या फटा था उसे नहीं मालूम था वो मुर्दा कदमों से खड़ी हुई एक हाथ से पर्स और टूटा जूता लटक रहा था दूसरा हाथ पहलू में खाली गिरा था खाली हाथ खाली दामन उसे दो वादे तोड़कर अब तीसरा निभाना था उसे वापस जाना था बादल गरजदार आवाज के साथ एकदम बरसने लगे मोटी मोटी बूंदे टप टप गिरने लगी तुर्की की पहली बारिश में भी वो नंगे पैर टूटे जूते के साथ चल रही थी आखिरी बारिश भी वो नंगे पैर थी मम्मी जवाहिर तक गई हैं मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ जेहान वो नंगे पांव खुरदरी जमीन पे चल रही थी कांटे चुप कर तलवों को जख्मी कर रहे थे मगर वो सामने देख रही थी बल्कि वो तो शायद कुछ भी नहीं देख रही थी जूते को क्या हुआ इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो लाओ दिखाओ जूता तड़ा तड़ गिरते कतरे उसे भिगो रहे थे बादलों ने सारा बोझ उतार कर जमीन और जमीन वालों को बोझल कर दिया था मैं बकवास करके गया था ना मगर मेरी कौन सुनता है इस घर में दो दिन ना हूं तो सारा निजाम उलट जाता है उसके पैरों से खून निकल रहा था जिस्म में जान नहीं रही थी लगता था अभी लड़खड़ाकर गिर पड़ेगी और अगर गिरी तो उठ ना सकेगी इंसान वही चीज मांगता है जिसकी उसको कमी लगती है सो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूं उसके हाथ में सिर्फ अपना एक जूता था दूसरा वहीं जैतून के दरख्त के पास रह गया था जब आधी रात के बाद हकीकत अपना नकाब उतारकर फेंक सकती है तो हर सिंड्रेला को एक जूता उसी मकाम पे छोड़कर वापस होना होता है उसे भी जाना था हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है किसी गैर हैंडसम गाइड से رابطہ करो वो बारिश के कतरे थे या आंसू जो उसके चेहरे को भिगो चुके थे दफतन उसका पैर रपटा वो ओंधे मुंह जमीन पर गिरी हथेलियां छेली गईं, चेहरे पे मट्टी लग गई बरसती बारिश स्याह रात बार दफा किस्मत हरा दिया करती है हया डीजे की डेथ हो गई है वो उठना चाहती थी उठना सकी वही झुकी बैठी सिसकियों के साथ रोते गई कीचड़ बारिश आंसू सब गिडमिड हो रहा था फुरकान मामू की फैमिली से डर लगता है क्योंकि वो सर्फ मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं बमुश्किल हथेली के बल जोर लगाकर वो उठ पाई पैर लहू लहान हो चुके थे वो लड़खड़ाती हुई मौसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी मैंने कहा था ना जिंदगी में कोई जन्नत के पत्ते लाकर दे तो उन्हें थाम लीजिएगा वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे कार सामने थी उसके दरवाजे को पकड़े पकड़े सहारा लिए खुद को संभालना चाहा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन सामने करते हैं तो उसे उल्टा नहीं पकड़ते स्टीयरिंग व्हील थामे उसने धुंधली आंखों से शीशे के पार देखा हर सू धुंध थी धुंध जो उनकी जिंदगियों से छटती ही नहीं थी अगर जादूगर अपनी ट्रिक फौरन बता दे तो क्या फायदा हर शेयर स्लो मोशन में हो रही थी सारी आवाजें बंद थी बस हरकत दिखाई दे रही थी उसने खुद को मरियम खानम के दरवाजे पे देखा बारिश उसी तरह बरस रही थी मगर उसकी समात बंद हो चुकी थी अच्छा तुमने पाशा भाई के ऊपर कॉफी उलट दी थी गुड वेरी गुड खानम उसको सहारा दिए बिस्तर पे लिटा रही थी उसके गिर्द सारी दुनिया गोल गोल घूम रही थी अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हया होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखो वो बिस्तर पे लेटी थी आंखों से बे आवाज आंसू बह रहे थे पाइंथी की तरफ बैठी मरियम खानम उसके पैरों पे दवा लगा रही थी उसे दर्द नहीं हो रहा था सारी हिस्सियात खत्म हो गई थी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा जो करना है अकेले करो और खुद करो क्योंकि तुम कर सकती हो वो अपनी ट्रॉली बैग घसीटती रेलवे स्टेशन पे चल रही थी दोनों पैर पट्टियों में बंधे थे कदम उठाती कहीं और थी पड़ता कहीं और था लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं जो बार बार जाने का पूछते हैं दिल करता है महसन की कबूतर की तरह बनकर किसी गार में छुप जाऊं ट्रेन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी वो खिड़की की तरफ बैठी भीगी सुर्ख आंखों से बाहर भागते मनाजिर देख रही थी जैतून के درخت पीछे रह गए थे शीशे धुंधला गए थे या उसकी आंखों में धुंध थी अब तो सारे फर्क खत्म हो गए थे मेरा नाम जिहान सिकंदर है मेजर जिहान सिकंदर अहमद सवानजी का सब्जरदार भी उसे कहर में डूबा था हर सू धुंध थी कोई आवाज कोई शोर नहीं उसने खुद को एक फैकल्टी अपार्टमेंट का दरवाजा बचाते देखा चीखना नहीं वरना आवाज बाहर जाएगी और ये सारी फैमिली भागती हुई आ जाएगी अंदर से निकलती फरबह माइल लड़की उसे देखकर परेशानी से उसकी जानिब बढ़ी थी वो क्या कह रही थी हया सुन नहीं पा रही थी बस अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती सुनाई दी मेरा सामान पैक करवा दें अंजुम बाजी अच्छा तुम्हें नहीं पता मैं कपादोकिया में हूं हाले उसके बैग के जिप बंद करते हुए कुछ कह रही थी अंजुम बाजी उसके जूते रख रही थी वो बस साकेत से सोफे पे बैठी सर झुकाए बे आवाज रो रही थी थोड़ी सी कॉटन ला दो फार्मेसी से कान में डालनी है अपने ट्रॉली बैग को हैंडल से घसीटती वो अतातुर्क हवालानी के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी बेजान कदम बेसोच निगाहें पता ही है तुम कब अच्छी लगती हो जब तुम खामोश रहती हो वो शनासा सा लड़का तेजी से उसकी तरफ आया था वो उसको पहचानती थी मगर उसको समझ ना पा रही थी वो बोल रहा था कुछ अब्दुल रहमान भाई ने कहा था कि आपसे मिल लूं कहीं आपको कुछ मदद की जरूरत ना हो आप बहारे गुल को लेकर चली गई मैं बहुत परेशान था आ, ये मम्मी ने भिजवाए हैं आपके लिए वो कोई पैकेट उसकी तरफ बढ़ा रहा था मेरी लोहत में दो बजे का मतलब होता है एक बजकर पचपन मिनट ऑफिसर उसको लैपटॉप हैंड कैरी में उठाने का कह रही थी उसने खाली खाली निगाहों से देखते लैपटॉप बैग उठा लिया अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे कुछ भी हो जाए मर जाऊं गिरफ्तार हो जाऊं जो भी हो तुम वापस गाड़ी तक जाओगी बस जहाज की खिड़की से नीचे बहुत दूर बोस्फोरस का समुंदर नजर आ रहा था नीली चादर सफेद झाग और उन सब पे छाती धुंध फिर भी उसने आंसू नहीं पोछे वो तुर्की से हमेशा रोते हुए जाती थी उसे इस दफा भी रोते हुए जाना था मगर कौन जाने कि इस दफा का गम सबसे बड़ा था वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी दफतन दरवाजे पे दस्तक हुई उसने आंखों से बाजू नहीं हटाया उसी तरह लेटी रही दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर चलते कदम आने वाले ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए उसे बंद आंखों से भी सूरज की रोशनी छन कर खुद पे पड़ती महसूस हुई थी हया उठ जाओ बेटा तबीयत कैसी है उसने सबीन फूफो की आवाज सुनी और फिर बेड की पॉइंटी के पास दबाव महसूस हुआ जैसे वो उधर बैठ गई थी बुखार उतरा तुम्हारा उन्होंने झुक कर उसके माथे को छुआ हया ने बाजू आंखों से हटाया और खाली खाली निगाहों से उनको देखा शानों पे दुपट्टा लिए बाल कैचर में बांधे वो वैसी ही थी पुरसकून साबिर ठंडी मैं ठीक हूं वो कोहनी के बल जरा सी उठी नकाहत पसमुर्दगी जैसे जिस्म में जान ही ना रही थी और ये तुम्हारे पांव को क्या हुआ नताशा कह रही थी कि अभी बैंडेज लाती है ये बैंडेज तो बिल्कुल खराब हो गया है उन्होंने होले से उसके पैर के अंगूठे को छू कर कहा जिस पे लगी पट्टी अब पुरानी और खस्ता हो चुकी थी हया तकिए के सहारे बैठी उसी तरह उन्हें देखती रही जिहान तुम्हारे साथ था उन्होंने नरमी से पूछा जब से वो आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि फूफो से बाकायदा अब बात हो पा रही थी उसने गर्दन को असबात में जुम्बिश दी गले में आंसुओं का फंदा सा पड़ने लगा था फिर और फिर के आगे सारे जवाब खत्म हो जाते थे उसकी आंखें डुबडुबा गईं। मैं नहीं जानती पुप्पो हम साथ थे वो कहने लगी तो आवाज बहुत बोझल थी उस रात आसमान पे बादल थे और चांद नहीं था तारे भी नहीं थे वो आगे जा रहा था मैंने उसे रोकना चाहा मना भी किया मगर उसने उसने मेरी नहीं मानी वो चला गया और फिर वो रुकी और पलक झपकी तो आंसू रुखसार पे लुढ़कने लगे फिर पता नहीं क्या हुआ मगर मगर वो वापस नहीं आया कमरे में चंद लम्हे के लिए बोझल सी खामोशी रही फूफो के चेहरे पे वो ही सुकून वो ही ठहराव था क्या उसे उसी वक्त वापस आना था नहीं उसने कहा था कि आने वाले मंगल को वो आ जाएगा तो अभी मंगल में कुछ दिन है ना वो आ जाएगा तुम फिक्र क्यों कर रही हो हया ने नफी में सर हिलाया वो नहीं आएगा वो मुश्किल में है मैं नहीं जानती कि वो ठीक भी है या नहीं मगर वो मुश्किल में है शायद जख्मी हो शायद गिरफ्तार हुआ हो और शायद उससे आगे फिकरा टूट गया दिल भी साथ ही टूट गया अगर उसने कहा था कि आएगा तो वो जरूर आएगा मुझे पूरा यकीन है उन्होंने जैसे दिलासा देते हुए उसकी हाथ की पुष्ट को थपका वो उन्हीं भीगी निगाहों से उनका पुरसकून चेहरा देखती रही मैं समझती थी कि आप में और मुझ में बहुत फर्क है पुप्पो आप सब्र से इंतजार करने वाली औरत हैं मगर मैं मैं चीजें अपने हाथ में लेकर जिहान के साथ चलने वाली औरत हूँ लेकिन अब मुझे लगता है कि तकलीफ हम दोनों के हिस्से में बराबर आएगी आप जाहिर नहीं करती और मैं छुपा नहीं सकती बस यही फर्क है बेयकीन ना हो बेटा अल्लाह से अच्छा गुमान रखो अच्छा ही होगा उन्होंने नरमी से उसका हाथ दबाते हुए कहा वो सर भी ना हिला सकी अजीब बेयकीनी सी बेयकीनी थी दरवाजा जरा सी दस्तक के साथ खुला पुप्पो और हया ने एक साथ उस सिमत देखा नताशा दरवाजे में खड़ी थी हया बदिकत फीका सा मुस्कुराई और आंसू हथेली की पुष्ट पर साफ किए हया क्या तुम उठ गई हो मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई थी वो खराब हो चुका है उसे उतार देते हैं नताशा रसान से अंग्रेजी में कहती हुई अंदर आई और छोटा सा बॉक्स बेड पे हया के पैरों के पास रखा फूफो उसको जगह देने के लिए उठ गई तो वो वहीं फुप्पो की जगह पे बैठ गई हुआ क्या था तुम्हें इतने जख्म कैसे आए वो अब हया की एड़ी से बैंडेज उतारते हुए बोली थी लहजा न ज्यादा मुतफक्कर था न ज्यादा सर्द पता नहीं वो उसे अच्छी लगती थी या बुरी वैसे तो बेजरर सी अलबत्ता उसका लिबास अल्लाह अल्लाह उस सारी परेशानी में भी हया के जहन में आया था कि ये इस तरह स्लीवलेस टॉप और कैपरी में घर में घूमती होगी और रुहेल या अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ था पैर पे नताशा ने दवा लगाते हुए दोबारा पूछा हया चौंकी कांच पत्थर जमीन पे बहुत कुछ गिरा था और मैं उन्हीं के ऊपर चलती रही बहुत बदहतियाती है वैसे ओके मैं इसे बैंडेज कर रही हूँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे ज्यादा गहरे नहीं हैं वो अब मसरूफ अंदाज में कहती उसकी पट्टी बांध रही थी दफअतन आसमानों पे आजान की आवाज गूंजने लगी फुप्पो जाने के लिए उठ खड़ी हुई उसने उन्हें नहीं रोका उसके पास उन्हें रोकने के लिए कोई जवाब ना था लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था सना और सहरिश अपनी अम्मी के साथ आई थी और हसब मामूल उनकी आमद पे इरम और सोनिया भी चली आई थी वो अभी तक कमरे में ही थी उनसे नहीं मिली थी अम्मा दरवाजे पे दो दफा आकर बाहर आने का कह चुकी थी अब तो बुखार भी उतर गया है बाहर आ जाओ वो कब से आई हुई है अच्छा नहीं लगता और फिर भी वो कुछ कहे बिना बैठी रही दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से मिलने को फिर काफी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले अभी पहना लिबास मलगजा सा हो रहा था ग्रे शलवार कमीज और साथ में पता नहीं किस जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहने बहुत बिखरे बिखरे से हुलिये में वो बीमार सी लग रही थी बैग खोल के ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पर गिफ्ट पैक में मलफूफ एक पैकेट रखा था उसने पैकेट उठाया कुछ मध्यम मध्यम सा याद था कि तफीर ने जाते हुए ये उसके हवाले किया था शायद हलीमा आंटी ने दिया था उसने रैपर फाड़ा अंदर बहुत खूबसूरत सफेद अनसिला सिल्क का कपड़ा था साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगा हुआ था उसने कार्ड उठाया हया के लिए बहुत दुआओं के साथ तुम हमेशा पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ फ्लाइट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरत से क्या कहा था ताकि वो तुमसे ज़्यादा फ्रेंक ना हो सके तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ उन्होंने उसे कहा था कि हमने ऐसी डिश का ऑर्डर किया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है और बात यह है हया कि तुर्क औरतों को तली हुई प्याज की खुशबू से सख्त एलर्जी है लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे कि कहीं किसी अजनबी से बेतकल्लुफी से तुम्हें नुकसान ना हो हम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं फ़कत हलीमा और उस्मान उसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट उमड़ आई कुछ बातें अधूरी भी रह जाएं तब भी उनकी तिश्नगी नहीं होती जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग डीजे कहने वाला लड़का उसे नहीं मिला था वो कौन था वो कभी भी नहीं जान पाएगी और कौन जाने कि उसको खुद भी पता था या नहीं कि डीजे इस दुनिया से चली गई है कौन जाने उसने बैग से कपड़े इधर उधर किए आगे पीछे हर जगह देखा फिर दूसरा बैग खोला उसका विंड चाइम कहीं नहीं था पता नहीं वो उसे कहाँ भूल आई थी दिल इतना खराब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाल केचर में बांधे ही बाहर आ गई मतलब हद हो गई एकदम से हमें इतना सुना दिए रजा भाई ने हमारा क्या कसूर और वो फायदा वगैरह उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना सना लाउंज के सोफे पे बैठी जोर और शोर और खफगी से कह रही थी हया को आते देखा तो बात रोक कर जल्दी से उठी हया आपा किधर हैं आप सब कह रहे थे कि आप आते साथ बीमार पड़ गई हैं वो बड़े तपाक से उसके गले लगी हया जबरदस्ती जरा सी मुस्कुराई सोनिया भी अच्छे से मिली बाकी सहरिश और इरम तो अपने अपने मूड में थी मगर उसे कहाँ परवा थी नताशा अपने मसरूफ अंदाज में बेनियाज थी सोफे पर बैठी मैगजीन के वर्क पलट रही थी तो फिर क्या तुमने फायदे से शिकायत की वो सब बैठ गई तो सोनिया भाभी ने सना को तफक्कर से देखते हुए सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा लाउंज के वस्त मेज पे शीशे के प्याले में स्ट्रॉबेरीज भरी थी दरमियान से कटी हुई सुर्ख रसीली स्ट्रॉबेरीज सहरिश बात सुनते सुनते एक एक फल करके खा रही थी हाँ आज जाकर फोन करती हूँ फायजाबाजी को हद है फिर हया को देखकर सना वजाहत करने लगी फायजाबाजी ने पता ही क्या किया क्या हया ने उसी के अंदाज में दोहरा दिया उसे कोई दिलचस्पी ना थी फायजा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात ताया अब्बा ने उसकी बेइज्जती की थी फायजाबाजी ने अरसल भाई के वलीमे की तस्वीरें फेसबुक पे लगा दी चलो अपनी लगाती खैर थी मगर हमारी टेबल की भी तीन तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक रख दी रजा भाई ने देखा और फिर हमें ही सुनाने लगे अब फायजा भाई से पूछो कहाँ क्या एथिक्स हैं ये कि किसी और की तस्वीरें लगा दो वो बस खामोशी से सना को देखती रही उसका जहन किलस की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था आपकी तस्वीर भी थी सना ने याद करके बताया उस पर वो जरा सी चौकी मगर आपकी तो खैर है आपने तो लपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना पता नहीं चल रहा था कि कौन है मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने वो सख्त रंजीदा थी गालिबन उनके घर आते हुए ही रजा से उनका टकरा हुआ था हां हया का दुपट्टा ना हुआ सुलेमानी चुगा हुआ इरम जरा हंसी हया ने निगाह फेर कर उसे देखा वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पे रखी स्ट्रॉबेरी को कांटे में फंसा रही थी फिर कांटा मुंह में ले जाते हुए उसने हया को देखा हया की निगाहों में कुछ था कि इरम बेख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को अपने दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है ऐसे हम सारे जमाने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहे तब कुछ नहीं होता लेकिन अगर भाई की यूनिवर्सिटी के सामने कार में भी गुजरो तो बस हाथ अंदर करो सर पे दुपट्टा लो मेरा कोई दोस्त गुजर रहा हो तो देखना नहीं उफ सना रजा की नकल करते हुए बोली तो सहरिश हंस दी इरम फकत मुस्कुराई फिर उसने हया को देखा वो अभी तक खामोश मगर गहरी नजरों से इरम को देख रही थी इरम जरा जज्बत होकर दोबारा सना को देखने लगी जिहान नहीं आया तुम्हारे साथ आया सहरिश ने बात का रुख फेरा तो हया ने निगाहें उसकी तरफ फेरी फिर हल्का सा नफी में सर हिलाया नहीं उसका लहजा सपाट था अच्छा तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ आएगा मासूम सा सवाल था मगर उसे बहुत जोर से चुभा सोनिया ने बेचैनी से पहलू बदला उसे यकीनन सहरिश का लहजा अच्छा नहीं लगा था कहा था मगर ऐसा नहीं हो सका उसने फकत यही कहा कोई सफाई नहीं कोई दलील नहीं कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं अब तो किसी बात का दिल ही नहीं चाहता था अच्छा सहरिश ने जरा से शाने उचकाते हुए आगे होकर एक और स्ट्रॉबेरी उठाई हया ने सुर्ख फलों से भरे प्याले को देखा सुर्ख रसीला फल सुर्ख जूते बेसन के किनारे पे लगा खून का सुर्ख कतरा उसका दिल भर आया था वो एकदम उठी और तेजी से कमरे की तरफ गई सब ने चौंक कर उसे देखा नताशा उसी तरह बेनियाज सी मैगजीन के सफे पलट रही थी हयाबाजी आपका फोन है वो अपने कमरे में लैपटॉप के सामने आयशे को मेल लिख रही थी जब नूर बानो ने दरवाजे से झांक कर सदा लगाई वो अच्छा कहकर सेंड का बटन दबाकर उठी और बाहर आई जिंदगी में नाउमीदी इतनी बढ़ गई थी कि फोन की घंटी पे भी चौंकना छोड़ दिया था मेजर अहमद उसे लैंडलाइन पे कभी भी कॉल नहीं किया करता था सो उसे दिलचस्पी ना थी कि किसका फोन है हेलो उसने क्रेडल के पास रखा उल्टा रिसीवर उठाकर कान से लगाया बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने और समझने का मुझे खुशी है कि आपने अकलमंदी का सबूत दिया वलीद का मुस्कुराता लहजा उसे लगता था कि सारे एहसास मर गए हैं मगर एक उबाल सा अंदर से उठा था हाँ अभी दिल में कुछ जिंदा था जो भी कहना है साफ कहो वो दबे लहजे में गुर्राई मेरे खिलाफ वो केस वापस लेकर आपने साबित कर दिया है कि आप एक अकलमंद खातून हैं लम्हे भर को उसके आसाब मफलूज हो गए थे केस वापस उसने तो नहीं फिर किसने मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया मैं जानता हूं कि आपके दबाव पे ही ये हुआ है और मैं जानता हूं कि आपने ये क्यों किया है ये कॉल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए की थी और ये पूछने के लिए कि हम फिर कब मिल रहे हैं वो जैसे बहुत मसरूर और मुतमईन था उसके अंदर जवार भाटा पकने लगा बमुश्किल उसने जब्त किया मैं फोन रख रही हूँ कल दोपहर एक बजे मैं जिना सुपर वाले पिज़्ज़ा हट पे आपका इंतज़ार करूँगा ज़रूर आइएगा मुझे कुछ अहम बातें करनी थी क्योंकि अभी वो आर्किटेक्ट वाला मसला हल नहीं हुआ अच्छा और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊंगी वो और होती हैं कमजोर लड़कियां जो तुम जैसों से डर जाती हैं माई फुट इतना गुस्सा आया था कि दिल चाह ये फोन दीवार पे दे मारे आपको आना होगा याद रखें वो वीडियो मेरे पास है अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आकर वो वीडियो आपके ही टीवी पे चलाकर दिखाऊंगा और ये मेरा वादा है उसके लहजे की सफाकी हया का दिल लरस के रह गया मगर जब बोली तो आवाज मजबूत थी तो फिर तुम कर गुजरो जो तुम करना चाहते हो ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे यूं मिलने चली आऊंगी जहन्नुम में जाओ तुम कहकर उसने फोन जोर से एक रेडल पे पटका फिर तेजी से मुड़कर अब्बा के कमरे की तरफ गई वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े टाई की नॉट सही कर रहे थे ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार अब्बा क्या आपने वलीद के खिलाफ केस वापस ले लिया वो परेशानी से कहती बिना इजाजत अंदर आई सुलेमान साहब ने चौंक कर उसे देखा और फिर वापस शीशे के सामने होकर चाय की नॉट तंग करने लगे हाँ वापस ले लिया मगर क्यों वो सदमे से बोली पहली बात यह है कि वो बहुत ही कमजोर केस था दूसरी बात यह है कि हमारे पास कोई खास गवाह नहीं है और तीसरी बात उसकी गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा फुरकान भाई को चोट गिरने से आई थी इसलिए इस केस का कोई फायदा नहीं था वो अब परफ्यूम उठा के खुद पे स्प्रे कर रहे थे बीमारी ने उनको पहले से काफी कमजोर कर दिया था लेकिन अब वो दिन ब दिन ठीक हो रहे थे मगर अब्बा आप जानते हैं कि उसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की हया मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ूंगा आर्किटेक्ट के साथ मिलकर जो उसने बेईमानी की है उस पे मैं उसे आड़े हाथों लूंगा थोड़ा इंतजार कर लो लेकिन अब्बा की बात के बरक्स उनका लहजा गैर संजीदा था वो मजीद सुने बगैर भागती हुई बाहर आई चंद ही लम्हों बाद वो ताया फुरकान के घर थी ताया अब्बा और सायमा ताई ड्राइंग रूम में अकेले नाश्ता कर रहे थे लड़के काम पे थे सोनिया और इरम भी साथ न थी ताए अब्बा वो परेशानी से उनके पास आई आओ हया तबीयत कैसी है वो हमवार लहजे में बोले साथ ही कुर्सी की तरफ इशारा किया पहले जैसी मोहब्बतें भी नहीं मगर पिछले कुछ अरसे वाली रुखाए भी नहीं दरमियाना सा अंदाज ताए अब्बा आप लोगों ने वली के खिलाफ केस क्यों वापस ले लिया वो बेचैनी से वहीं खड़े खड़े बोली साइमत आई उसके लहजे पे बेख्तियार पलट कर उसे देखने लगी मैंने नहीं लिया तुम्हारे अब्बा ने लिया है वो इतने गलत भी नहीं है केस कमजोर है वक्त और पैसे जाया करने का फायदा मगर इस तरह तो वो और भी शेर हो जाएगा वो समझेगा कि हम हया सब ठीक है चोट मुझे लगी थी जब मैं समझौता करने पे मजबूर हूं तो फिर ताया अब्बा भी शायद वलीद के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई के हक में ना थे कारोबारी सियासतें उफ और आर्किटेक्ट वाला केस देखो हम इसको खुल्ला खुला तो डील नहीं कर सकते कंपनी के हिसाब को नुकसान पहुंच सकता है मगर तुम्हारे अब्बा उससे जरूर निपटेंगे सब ठीक हो जाएगा तुम फिक्र ना करो वो जानती थी कि अब उससे कोई नहीं निपटेगा वो उसे सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट वाले केस का डरावा दे रहे थे ताकि उसको सीधा करके रख सकें शतरंज सियासत आप नहीं समझेंगे उसने तासुब से नफी में सर झटका हया जहान नहीं आया साइमा ताई ने उनकी गुफ्तगु को इख्तदाम पजीर होते देखा तो रह ना सकी अल्लाह अल्लाह फिर वही सवाल उसके असाब ढीले पड़ गए वो नहीं आ सका ताई आवाज भी धीमी पड़ गई तो कब आएगा तुम्हारे अब्बा और अम्मा तो चाह रहे थे कि तुम्हारा निकाह भी रुहेल के वलीमे के साथ अनाउंस करें मगर ताई ने हुंकारा भरा और बात अधूरी छोड़ दी वो नामुकम्मल मायने अखस किए बगैर पलट दी ताया अबा उस वक्त अखबार की तरफ मुतवजह हो चुके थे हर कोई पूछता था कि वो नहीं आया कोई ये क्यों नहीं पूछता कि वो क्यों नहीं आया सब अपने मफाद की बात पूछते हैं जहान की तो किसी को फिक्र ना थी उसकी मेल पे आयशे का जवाब आ गया था उसने कहा था कि वो शाम में ऑनलाइन होगी तब वो दोनों बात करेंगी वो ऐसे से क्या बात करना चाहती थी वो नहीं जानती थी बस वो अपना दुख और इस तरह किसी से बांटना चाहती थी किसी सिपाही की बीवी होकर दिनों हफ्तों महीनों उसका सब्र से इंतजार करना कितना तकलीफदा होता है वो आप जान पाई थी कैसी हो स्क्रीन पे आयशा का शफाफ खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था वो कंप्यूटर के सामने रिवॉल्विंग चेयर पे बैठी थी और बात करते हुए वो शीशे की नन्ही प्याली से तुर्क चाय के घूंट भर रही थी मुझे नहीं पता मैं कैसी हूं वो उदासी से बोली थी मलगजे लिबास और कैचर से बंधे बालों में हया बहुत कमजोर और अफसुरदा दिखाई देती थी क्या हमारा आना अच्छा नहीं लगा आयशा ने हैरत आमेज मुस्कुराहट के साथ प्याली साइड पे रखी कपादोकिया वस्ती अनातोलिया में वाक़ था नहीं बहुत अच्छा लगा वो फीका सा मुस्कुराई बहारे बता रही थी तुम लोग अनकरा भी गए थे क्या उसके जाने के बाद तुमने अनकरा देखा या वापस आ गई मैं किलस चली गई थी उसके लबों से फिसला चाय की प्याली उठाती आयशे जरा चौंकी थी अच्छा किस दिन गई तुम किलस इतवार को गई थी मंगल की दोपहर वापस आ गई अब छुपाने का क्या फायदा था आयशा चंद लम्हे कुछ सोचती रही प्याली उसके हाथ में थी मगर वो उसे लबों तक ले जाना जैसे भूल गई थी क्या बॉर्डर वहां से बहुत करीब पड़ता है हाँ बहुत करीब उसकी निगाहों के सामने फिर से वही रात घूम गई वो खौफनाक बरसती बारिश वाली रात तो क्या बॉर्डर की सारी खबरें किलस में लोगों को मिल जाया करती हैं किस किस्म की खबरें आयशे उसने अचंभे से स्क्रीन को देखा मतलब जो लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनकी गिरफ्तारी की खबरें क्या मंगल की सुबह तुमने कोई ऐसी खबर सुनी थी वो बहुत सोच सोच कर बोल रही थी और लम्हे भर के लिए हया को लगा उसका सांस रुक गया है वो अपनी बहन की जासूस है सारी बातें उसको बताती होगी तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास था बाहर है क्या तुम लोग किलस जाओगे अब्दुलरहमान किलस का नाम ले रहा था हया आयशा ने उसे पुकारा वो चौंकी कड़िया से कड़िया मिलाई तो एक अजीब सा ख्याल जहन में उभरा नहीं ये नहीं हो सकता आयशा किसी को पुलिस को क्यों बताएगी मगर फिर वो बॉर्डर की गिरफ्तारी के बारे में सुनने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती थी हाँ पीर और मंगल की दरमियानी रात वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था आयशे मगर सिक्योरिटी एहलकार उसके इंतजार में थे वो गिरफ्तार हुआ या मारा गया मैं नहीं जानती मगर मैं इतना जानती हूँ कि कि वो उसके इंतजार में थे क्योंकि तुमने उनको बताया था है ना पता नहीं कैसे ये सब उसके मुंह से निकला था लाशौर में जुड़ती कड़ियां मिलकर एक ऐसी जंजीर बना गई थी जिसने उसके गले में फंदा डाल दिया था आयशे लम्हे भर को खामोश हो गई हया को लगा वो इनकार कर देगी मगर वो झूठ नहीं बोल सकती थी हाँ मैंने उनको कॉल की थी ये मेरा फर्ज था अगर मुझे ये मालूम हो कि एक कौमी मुजरिम कानून तोड़ने जा रहा है तो मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना चाहिए था वो बेयकीनी से आयशे को देख रही थी वो कितने आराम से ये सब कह रही थी क्या उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कह रही थी मरहबा आया बहारे कहीं पीछे से आई और बहन के कंधे से झूल कर चहक कर स्क्रीन में देखा हया ने जवाब नहीं दिया वो अभी तक आयशे को देख रही थी अब्दुलरहमान मुजरिम नहीं था आयशे वो मुजरिम नहीं था चाय का घूट भरते भरते आयशे गुल ठहरी उसकी आंखों में अचुंबा उभरा अब्दुलरहमान का क्या जिक्र तुम हया ने लब खोले मगर रुक गई उसके अंदर उबलता गुस्सा बेयकीनी सब कुछ रुक गया कहीं कुछ गलत था तुम तुमने आयशे हम अब्दुलरहमान की बात कर रहे हैं जिसे मैंने किलस में खो दिया है बेबसी से उसने कहना चाहा बहारे कभी आयशे को देखती और कभी स्क्रीन को चाय की प्याली बेख्तियार एक तरफ रखते हुए वो सीधी हुई उसके आंखों में उभरी हैरत अब बेयकीनी में बदल गई थी अब्दुल रहमान किलस में क्या कर रहा था तुम जानती हो वो क्या कर रहा था तुमने सिक्योरिटी को बता दिया कि उसके बॉर्डर क्रॉसिंग का हया वो किलस में नहीं था उसे अनकरा से जर्मनी जाना था वो किलस क्यों गया तुम जानती हो वो किलस में था आयशे तुम्हें तुम्हें भारे ने बताया था मुझे मालूम है जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज बुलंद हो गई थी बहारे गुल तुम जानती थी आयशे ने बेयकीनी से अपनी बहन को देखा वो बेसाख्ता सहम कर पीछे हुई मैंने कुछ नहीं किया सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं उसकी आंखें डुबडुबा गईं। वो मंगल की रात बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था क्या ये तुम्हें भारे ने नहीं बताया वो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था नहीं हया ये नहीं हो सकता आयशे अभी तक बेदम बखुद थी मैंने उसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं कहा मैंने तो नसूह फखरी के बारे में बताया था सिक्योरिटी को उसने बॉर्डर क्रॉस करना था मंगल और पीर की दरमियानी शब वो जिहान था आयशे जिसके बारे में तुमने उनको बताया और और तुमने कॉल ही क्यों की सिक्योरिटी को वो दबी दबी चिल्लाई थी उस रात के जख्म बारूद की बू रोशनी के गोले सब फिर से ताजा हो गया था क्योंकि मुझे अब्दुल रहमान ने ऐसा करने को कहा था वो बेबसी से बोली थी बहार ने ताइद में सर हिलाया मेरी बहन सच कह रही है मैंने उनकी बातें सुनी थी चर्च में और हया को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी आयशे तुम्हारा फोन बज रहा है आने के पुकारने पे वो चौकी गोद में रखा मोबाइल जाने कब से बज रहा था बहारे नंबर पे लिखा नाम बहुत मोहब्बत से लेकर उसने आने को बताया और सब्ज बटन दबाकर फोन कान से लगा लिया सलाम वालेकुम उसने मुस्कुराकर सलाम किया वालेकुम अस्सलाम कैसी हो ईरान से हजारों किलोमीटर दूर वो अहलारा वादी के चर्च में खड़ा बहारी के फोन को कान से लगाए कह रहा था साथ ही उसने पलट कर देखा चर्च के खुले दरवाजे से बैरूनी सीढ़ियां नजर आ रही थी जो पहाड़ के नीचे तक जाती थी हया अभी नमाज पढ़कर नहीं आई थी और बहारे के पर्स से फोन पहले से निकालकर उसने उसे तस्वीरें खींचने चर्च की ऊपरी मंजिल पे भेजा था मैं ठीक हूँ तुम सुनाओ तुर्की वाले कैसे हैं उसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई तमानियत के सारे रंग आंखों में उतर आए थे बहुत दिन बाद उसने अब्दुलरहमान की आवाज सुनी थी आयशे याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे एक फेवर दोगी वो चर्च की चौखट में खड़ा सीढ़ियों को ही देख रहा था हालांकि आने से पहले पहले उसे बात खत्म करनी थी हाँ बताओ क्या हुआ तुम तुर्की के सबसे बड़े बॉर्डर के बारे में क्या जानती हो कौन सा बॉर्डर तुर्की और शाम का दूसरी जानेब वो चौकी थी हाँ इस बॉर्डर को एक कौमी मुजरिम इस मंगल की रात क्रॉस करेगा गैर कानूनी तौर पे ऐसे में तुम्हें कुछ करना है चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोली हाँ कहो फिर मैं सुन रही हूं तुर्की का तुम पे कर्ज है ऐशे अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि एक मुजरिम तुर्की का एक कौमी मुजरिम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए आयशे खामोश रही थी वो आवाज मजीद धीमी करते हुए बोला तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर को फोन करना चाहिए तुम्हें उनको बताना चाहिए सब कुछ ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सकें मगर नहीं आयशे गुल ये कैसे करेगी आयशे गुल तो कुछ नहीं कर सकती जरा ऊंचा बोलो इतना आहिस्ता मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कोई आसपास है वो बुरा मानकर जरा खबगी से बोली जैसे आखिरी फिक्रे को नजरअंदाज करना चाह रही है मैं नहीं चाहता कि कोई सुने तुम ये सब लिख लो और कमांडर का नंबर भी फिर वो उसे तमाम जरूरी बातें बताता गया और वो लिखती गई उन्हें तुम्हारी कॉल ट्रेस करने में 90 सेकंड्स लगेंगे तुमने 80वें सेकेंड्स कॉल काटनी है तुम ये करोगी ना तुमने मुझसे वादा किया था और तभी उसको अपनी पुष्ट पे आहट का एहसास हुआ वो तेजी से पलटा अंदर चर्च की सीढ़ियों पे हरकत सी हुई थी कोई आ गया है बाद में कॉल करूंगा और उसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सुबह रफ्तारी से आगे आ गया और सीढ़ियों की ओट में खड़ी बहारे गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला मैं अभी आई थी वल्लाह मैंने कुछ नहीं सुना छोटी बिल्ली बौखला गई थी मगर वो लब भीचे बरहमी से चर्च से उसे बाहर ले आया था तो तुम मेरी बातें सुन रही थी तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया नहीं कि किसी की बातें छुपकर नहीं सुनते मेरी बहन को कुछ मत कहो जो तुमने सुना है अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बाहर वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था अगर और अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊंगा सीढ़ियों पे टिक टिक की आवाज गूंजने लगी वो ऊपर आ रही थी जहान ने बहारे को मोबाइल वापस किया जिसे उसने जल्दी से अपने पर्स में डाल दिया अगर तुमने मेरी बात ना मानी बहारे मैंने कुछ नहीं सुना वो रूहान सी हो गई थी हया तब तक ऊपर पहुंच चुकी थी उसने ये सब कहा वो बेयकीनी से स्क्रीन पे नजर आती आयशा और बहारे को देख रही थी हाँ मेरी बहन सच कह रही है मैंने खुद सुना था तुमने ये सब सुना था और वो समझती रही कि शायद उसने उसकी और जिहान की बातें सुनी थी मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे वो सुन भी लेती तो उसे क्या समझ आता उसने उनकी बातें सुनी ही नहीं थी वो एक दफा फिर एक तरफ की कहानी से नतीजा अखज कर गई थी उसने अपनी मुखबरी खुद करवाई उसने खुद को खुद गिरफ्तार करवाया मगर क्यों इस सारे किसी का कोई सेंस ना बनता था वो हैरान थी परेशान थी तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हो गया है आयशे ने बेचैनी से पूछा मैंने खुद देखा था वो हया के अल्फाज लबों पे टूट गए उसने क्या देखा था हेओले धुआं रोशनी के गोले एक तरफ की कहानी मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था मुझे नहीं पता वो बेबसी से नफी में सर हिलाने लगी फिर एकदम झमाके से उसे याद आया ध्यान के जूतों का रुख जब वो उठा था तो उसके जूतों का रुख बाएं जाने था हालांकि वो सरहद की तरफ मुंह किए खड़ा था क्या वो सरहद की तरफ नहीं जा रहा था वो बाएं जाने जा रहा था मगर बाएं तरफ क्या था प्लीज तुम्हें जब भी कुछ पता लगे मुझे जरूर बताना अगर उसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं करूंगी आयशे बहुत फिक्रमंद बेचैन हो गई थी हया ने धीरे से इस में सर हिलाया आयशे को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज भी उसके पास ना था सरहद की वो रात और हिरकलतस की दायमी आंख से उठते हुए धुएं के मरगोले सब फिर से जहन में ताजा हो गया था उसने दीवार पे लगी कैलेंडर की तारीखों को एक दफा फिर देखा अभी अभी उसने सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था अब मजीद दो रोज बाकी थे फिर मंगल था पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा डूबती उम्मीद के दरमियान उसका दिल बनने सवरने तैयार होने किसी भी चीज को नहीं चाह रहा था सादा सफेद शलवार कमीज और शानों पर फैला सफेद दुपट्टा और ढीले जूड़े में बंधे बाल वीरान आंखें दिल तो वहीं जैतून के दरख्तों में खो गया था वो बाहर आई तो रोहेल किचन की अधखुली दीवार के पीछे से नजर आ रहा था उसे आते देखकर जरा सा मुस्कुराया योगी वो कप में कांटे से कॉफी फेंट रहा था हम्म वो हल्का सा नफी में सर हिलाते आगे आई और किचन की सेंटर टेबल की कुर्सी खींचकर बैठी और क्या हो रहा है ध्यान ने कब आना है घूम फिर कर वही सवाल अच्छा है ना वो नहीं आया सब खुश हो गए उसे और मुझे साथ देकर खुश था ही कौन भला वो तलखी से बोली अरे मैं तो खुश था बल्कि वो आता तो और भी खुश होता खैर फूफो कह रही थी कि वो मंगल को आ जाएगा रुहेल पूछ रहा था या बता रहा था वो समझ नहीं सकी फूफो को तो उसने खुद ही बताया था मगर जब उसे खुद ही यकीन नहीं था तो रुहेल को क्या यकीन दिलाती नताशा कहाँ है उसने इधर उधर देखते हुए मौजू बदला अंदर होगी वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिजाइनिंग करती फिर रही है अच्छा खुश है वो पाकिस्तान आकर हम्म रूहेल ने कॉफी फेंकते हुए जरा से शाने उचकाए यहां था या ना वो समझ नहीं पाई और अब तो अब्बा भी ध्यान से खुश थे तो पहले कौन सा वो वो कहते कहते रुकी एकदम से कुछ याद आया था ब्यूकदा में जब रोहेल से उसकी बात हुई थी तब उसने कुछ बताया था तुमने बताया था रोहेल याद है कि अब्बा किसी वजह से ध्यान से खफा थे छोड़ो हया रहने दो वो तो बस ऐसे ही नहीं मुझे बताओ तो सही तुमने कहा था बाद में बताऊंगा कोई खास बात नहीं थी लेकिन जब अब्बा डेढ़ साल पहले इस्तांबुल में सबीन फुप्पो से मिले थे तो उन्होंने किसी लड़की को जिहान को ड्रॉप करते देखा था बस उसी बात से उनके दिल में ग्रह लग गई थी मगर खैर छोड़ो इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है और हाया को तो ये बात अच्छे से याद थी उसने अब्बा और ताया की बातें सुनी थी हाँ वो यही बात कर रहे थे लेकिन जहान ने उसे ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि उसने पूछी ही नहीं थी तो क्या अभी भी कुछ ऐसी बातें थी जो वो उसे नहीं बताना चाहता था जैसे आयशे को वो सब कहना उफ वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फोन की घंटी बजी हया ने आगे होकर फोन उठाया जहन में पहला ख्याल वलीद का आया था हया क्या तुम फारिग हो साइमा ताई बहुत ही शीरी लहजे में बोल रही थी यकीनन कोई काम था जी बताइए इरम के साथ मार्केट तक हो आओ कुछ कमीज लेनी है और अपने ताया का तो तुम्हें पता ही है वो अकेले जाने कहां देते हैं ओके मैं आ रही हूं कोई और वक्त होता तो शायद वो ना आती लेकिन उससे इरम से भी तो बात करनी थी सो एक नहज पे पहुंचकर वो अपनी जगह पे खड़ी हुई उसने कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पे किया चाबी घुमाते हुए इरम को देखा शलवार कमीज पर स्कार्फ लिए वो जरा बेचैन बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाजा को देख रही थी चले उसके बाद पेरम चौकी हां चलें मुझे कुछ कमीजें लेनी है बल्कि ऐसा करते हैं कि इरम जरा तजब्जुब से रुकी मुझे पिंक कलर में लॉन्ग चाहिए तुम यूं करो तुम शॉप के अंदर चली जाओ और जो अच्छा लगे निकलवा लेना तुम्हारा टेस्ट भी ज्यादा अच्छा है मुझे कुछ ज्वेलरी भी उठानी थी मैं तब तक दूसरे प्लाजा से उठा लूं तुम बैठो मैं आती हूँ वो जैसे सारी तमहीद तैयार करके लाई थी और अब जल्दी जल्दी लॉक खोलने लगी मैं भी साथ चलती हूँ नहीं खैर है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तुम्हें यूं क्यों थकाऊं बस दस मिनट तो लगेंगे विरम अगर तुम्हें यूं अकेले जाना है तो पहले अपने अब्बा से पूछ लो उसने कहने के साथ ही अपने मोबाइल पे ताया का नंबर मिलाया और कॉल के बटन पे हाथ रखे मगर दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई दरवाजे को खोलता इरम का हाथ ठहरा आंखों में उलझन और फिर गुस्सा डराया तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ नहीं मुझे लगता है कि तुम वलीद से मिलने जा रही हो उसने बगौर इरम को देखते हुए रसान से कहा एक लम्हे के लिए इरम के चेहरे का रंग बदला उसने थूक निकला मगर फिर वो जी कड़ा कर बोली और अगर जा भी रही हूं तो क्या कर लोगी तुम मैं अकेली घर चली जाऊंगी और किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी फिर जब तुम तनहा आओगी तो सबको खुद ही वजाहत दोगी मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी का बकरा क्यों बनू हमेशा मैं किसी से नहीं डरती हया वो तो मुझे मालूम है तुमने जो मेरी वीडियो देने की हरकत की है उससे पता चल गया था कि तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है कौन सी वीडियो इरम ने आईब्रो उठाई चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि ये हरकत उसी ने ही की थी फोन पे भले वो जितनी मजबूती से बात कर ले सामने की बात और होती है तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ तुमने इस तरह करने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि उसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी वो दुख से इरम को देखते हुए बोली गाड़ी के शीशे आधे खुले थे उसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाज वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी हया दुख से और इरम तलखी से मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली इरम तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो उसने इल्तजा नहीं की थी बस कतियत से कहा था अच्छा ये चाहती हो तुम और अगर मैं ना लू तो इरम के चेहरे पे कड़वी सी मुस्कुराहट थी तो तुम नतज की जिम्मेदार खुद होगी और अगर मैं इस शर्त पे लू कि तुम अब्बा के सामने जाकर कहोगी कि मैं उस रात तुमसे ही बात कर रही थी और वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसने अब्बा के फोन करने पे फोन उठाया तो क्या तुम ऐसा कर लोगी हया चंद लम्हे बहुत दुख से उसे देखती रही यू नो वॉट तुम और वलीद एक जैसे हो जब खुद फंसे हुए होते हो तब भी तुम्हें लगता है कि दूसरों को अपने इशारों पे नचा सकते हो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी तो भी ठीक है करने दो वलीद को उस वीडियो के साथ जो वो करना चाहता है चल लम्हे दोनों के दरमियान एक तल्ख सी खामोशी हाल रही हया सोचते हुए वेंड स्क्रीन के पार देखती रही किसी तरह उसे इरम को कन्विंस करना था कि वो वलीद से वीडियो वापस ले ले किसी भी तरह इरम मेरी बात सुनो इसमें तुम्हारा पार्ट भी है सिर्फ मैं नहीं तुम भी बदनाम हो जाओगी पहली दफा इरम के चेहरे पे एक मुतमिन सी मुस्कुराहट उभरी आर यू श्योर हया कि उसमें मेरा पार्ट भी है और हया सुन सी रह गई इसका मतलब था कि इरम ने अपना पार्ट एडिट कर दिया था और वो इन कामों में बहुत अच्छी थी उसे पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती थी तो तुमने सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए ये सब कुछ किया इरम तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो वो जो इतनी देर से सपाट लहजे में बात कर रही थी अब के उसकी आवाज में शदीद सदमा दराया था हाँ करती हूँ और मुझे तुम्हारे इस बुरके से भी नफरत है हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे अब्बा से बातें सुननी पड़ती हैं इरम एकदम फट पड़ी थी जब रुहेल भाई अमेरिका गए और तुम यूनिवर्सिटी तो तुम एकदम मॉडर्न हो गई अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकते थे सोनों ने मुझ पर रोक टोक ज्यादा कर दी कि कहीं मैं तुम्हारी जैसी ना बन जाऊं तुम्हारी वजह से मुझ पर सख्तियां बढ़ी हैं और अब मैं तंग आ गई हूं इस जबरदस्ती के स्कार्फ से मेरा बस चले तो मैं इस शहर के सारे स्कार्फ शॉप्स को आग लगा दूं नहीं करना मुझे स्कार्फ क्यों करते हैं अब्बा इतनी सख्ती वो एकदम रोने लगी थी तो फिर क्या करें वो सख्ती ना करे तो क्या अपनी बेटियों का खुला छोड़ दे कि जो मर्जी करे ऐसा नहीं हो सकता इरम हाँ ठीक है उनको जहन साजी भी करनी चाहिए उन्हें स्कार्फ के लिए पहले कन्वेंस करना चाहिए मगर इरम उनकी नीयत तो हमेशा अच्छी थी ना उसने समझाने की कोशिश की इरम के आंसुओं से उसका दिल जरा पिघला था तुम्हें ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो ठीक है चलो घर मुझे नहीं जाना कहीं वो आंसू पोछती एकदम बहुत तलखी से कहती सीधी हुई हया ने अफसोस से उसे देखा दिल में जो नरम गोशा बनने लगा वो फौरन मिट गया आखिर वो भूल भी कैसे सकती थी कि इरम ने वलीद को वो वीडियो दी थी इतना बड़ा धोखा उसने हया के साथ किया था उसने अफसोस से सर झटका और इग्निशन में चाबी घुमाई कार के इंजन में हरारत पैदा हुई इरम भीगी निगाहों से शीशे के पार देख रही थी उसे अब भी अपनी ही फिक्र थी अपना स्कार्फ अपने अब्बा की सख्तियां अपनी मजबूरियां उसे अब भी हालांकि या उस वीडियो की फिक्र नहीं थी मंगल आया सुबह हुई दोपहर चढ़ी शाम उतरी और रात छा गई वो नहीं आया बुध भी गुजर गया और जमरात को जाहिद चचा की बेटी महविश पाकिस्तान आ गई मगर वो शदीद क्राइसिस में थी जाहिर चचा और आपदा चची ने किसी को नहीं बताया मगर सहमत ताई को अपनी किसी सोर्स से पता लग गया महविश का शोहर उससे अगली फ्लाइट में आ रहा था मगर इमिग्रेशन के किसी चक्कर में फंस गया और एन वक्त पे गिरफ्तार कर लिया गया महविश की फ्लाइट चूंकि एक रोज कबल की थी सो वो उस वक्त तक पाकिस्तान आ चुकी थी और फिर खबर मिलते ही ताया फुरकान और उनकी फैमिली समेत सब ही आपदा चची की तरफ इकट्ठे हो गए थे डाइनिंग हॉल में मेज के गिर छह कुर्सियों पर सोनिया और वो पांच कजन्स बैठी थी महविश खामोश थी और वो सब भी हया तो सरबराही कुर्सी पर बैठी दुपट्टा सर से ठीक से लिए देख भी कहीं दूर खला में रही थी डाइनिंग हॉल और डाइनिंग रूम के दरमियान जालीदार पर्दा आधा गिरा था उसके पार सोफों पे सब बड़े बैठे थे लड़के वगैरह भी इकट्ठे हो गए थे सो बाहर लॉन में थे अब तो हया की वजह से वो लड़के वाली तरफ आने से भी झिझकते थे रुहेल और नताशा अलबत्ता सोफों पे ही बैठे थे अफान के माँ बाप क्या कहते हैं ताया अब्बा पूछ रहे थे उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी जवाब में आबिदा चची बुरे दिल से कुछ बता रही थी उनको यकीनन सबका अफसोस के लिए आना अच्छा नहीं लग रहा था आजकल के लड़की का पता ही नहीं किन चक्रों में होते हैं सायमत आई ने हमदर्दी से कहा था महविश ने दबे दबे गुस्से से जालीदार पर्दे को देखा और एकदम उठकर अंदर चली गई सोनिया ने अफसरदगी से उसे जाते देखा क्या किया जा सकता था बस अल्लाह ताला खैर से उसे वापस पहुंचा दे फुप्पो ने धीरे से कहा था उन्हें भी साइमत आई का यूं इसरार से सबको अफसोस के लिए उधर लाना अच्छा नहीं लगा था जिहान की क्या खबर है सबीन मंगल तो गुजर गई उसका कोई अता पता ही नहीं साइमत आई को फूफो का टोकना बुरा लगा तो तोपो का रुख अफान से जिहान की तरफ कर दिया हया चौंक कर आधे हटे पर्दे को देखने लगी आ जाएगा भाभी किसी मसले में होगा तभी देर हुई है फूफू की आवाज मजीद धीमी हो गई तुम भी अपने बेटे पे नजर रखा करो सबीन ताया अब्बा ने उसी अंदाज में कहा जिसमें वो अफवान की बात कर रहे थे पता नहीं वो भी किसी ठीक काम में है या अपने बाप के जनाजे में भी तो नहीं आया था जिहान का यहाँ क्या जिक्र भाई फुप्पू के लहजे में दबा दबा शिकवा था हाया ने मेज का कोना सख्ती से पकड़ा पेशानी की लगे भीज गई थी अंदर एक उबाल सा उठा था अफान का भी तो हमें मालूम नहीं था यहाँ शायद किसी का भरोसा नहीं होता तायाबा ने फुप्पो की बात सुने बगैर तबसरा किया हालांकि अंदर का उबाल बस किसी लावे की तरह फट पड़ने को तैयार था बमुश्किल वो जब्त करके लब भींचे बैठी रही ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ हया ने मुड़कर देखा जालीदार पर्दे के पास फुप्पो जरा खबरी से कहती नजर आ रही थी उसने कायमत आई और आबदा चची के चेहरों के मायने इस तासुरात देखे और फिर अब्बा को देखा जो खामोशी से फूफो को ही देख रहे थे सच कहूं तो सबीन मुझे तुम्हारे बेटे के काम मशहूक से लगते हैं कभी कहता है रेस्टोरेंट है कभी कहता है जॉब से छुट्टी नहीं मिली बेहतर होगा तुम उसको भी चेक में रखा करो ताकि कल को कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो क्या काम करता है और ताया तो की उस बात पर उसे लगा कि उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई है बस बहुत हो गया अब मजीद वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी ये ठीक था कि उसे राज रखने आते थे मगर उसे सिर्फ वो राज रखने चाहिए थे जिनके रखने का कोई फायदा हो अब मजीद नहीं वो तेजी से उठी और जालीदार पर्दा उठाकर ड्राइंग रूम के दहाने पर आई उसके यूं आने पे सब ने उसे मुड़कर देखा था क्या आप जानते हैं ताया अब्बा कि वो क्या काम करता है अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं हाँ ये ठीक है कि वो बड़े थे और उनसे अदब से बात करनी चाहिए थी मगर वो अपने लहजे में पिनहा गुस्से को जब्त किए जब बोली तो उसकी आवाज काफी बुलंद थी साया ने कदरे हैरानी कदरे बरहमी से उसे देखा और फिर सुलेमान साहब और फातिमा को जैसे कह रहे हो कि उनकी बेटी को क्या हो गया है शायद आप नहीं जानते ठहरे मैं आपको बता देती हूँ ध्यान अभी इसीलिए नहीं आ सका क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट में फंसा हुआ है आप तो ये भी नहीं जानते होंगे कि वो हमारी एजेंसी का एक एजेंट है एक बहुत काबिल आर्मी ऑफिसर ये बात कहकर जब वो फारिग हुई तो उसने बारी बारी सबके चेहरों को देखा ताया अब्बा साइमा ताई जाहिर चचा आबिदा चची सब हैरान सी नजरों से उसे देख रहे थे जैसे उन्हें समझ नहीं आया हो कि उसने क्या कहा है आहिस्ता आहिस्ता उसके अल्फाज उनके सहनों में ठहरने लगे और उनके मायने उनके सामने आया होने लगे army officer agent Tayyaf Furqan ने कुछ हैरान निगाहों से पहले उसे देखा जो अपनी बात कह चुकने के बाद जरा पुरसुकून सी चौखट पे खड़ी थी फिर सबीन फूफो को देखा जो खामोशी से सोफे बैठी थी मगर उनकी आंखों का सुकून इस बात का उमास था कि उन्हें हया की इस बात से खुशी हुई है जरूरी तो नहीं था कि सब कुछ जिहान आके बताता उन्हें शायद जिहान ने मना कर रखा था सो उन्होंने बेटे का मान भी रखा लेकिन हालांकि इस अमल से जैसे उनको ढेरों सुकून मिल गया था वो हमारी एजेंसी के लिए काम करता है साइमत आई शॉक्ट से बोली क्या वो आर्मी ऑफिसर है क्या वाकई जी ताई ये सच है वो सीने पे बाजू लपेटे बहुत एतमाद से कह रही थी हर दफा इंसान को अपने लिए जंग नहीं लड़नी होती कई दफा दूसरों के लिए भी लड़नी पड़ती है और वो उस वक्त वही कर रही थी उसने बहुत अरसा यह बात अपनी तक रखी आप लोगों को नहीं बताई इसलिए नहीं कि वो आपको अपना नहीं समझता था हां ठीक है उसकी जॉब की नौयत ऐसी थी कि उसे अपनी असल शनाख्त छुपा के रखनी थी लेकिन वो चाहता तो बता सकता था जैसे फुप्पो को हमेशा से मालूम था जैसे बहुत से दूसरे लोगों को मालूम था लेकिन उसने आप लोगों को नहीं बताया शायद इसलिए कि वो आपका मान नहीं तोड़ना चाहता था वो मान जिसके साथ बहुत साल पहले आप लोगों ने उसने लोगों कहते हुए ताया फुरकान को देखा बहुत फखर से कहा था कि किसी गद्दार के बेटे को फौज में कमीशन नहीं मिल सकता हालांकि ऐसा नहीं होता अब्बा कितने ही गद्दारों के बेटे भतीजे आज भी फौज में काम कर रहे हैं और बहुत दयानतदारी और मोहब्बत वतनी से कर रहे हैं इसलिए जब उसको जॉब मिल गई तो उसने आपको नहीं बताया ताकि आपका मान ना टूटे ताकि आपके फख्र को ठेस ना पहुंचे वो जानती थी कि वो काफी ज्यादा बोल रही है बड़ों के सामने इतना नहीं बोलना चाहिए मगर बात करते हुए भी वो तमीज और तहजीब की सरहद से आगे नहीं निकल रही थी अलबत्ता उसकी आवाज जरा ऊंची थी बाज दफा इंसानों के खुद गर्ज मजमे को अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा सा बदतमीज थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा था कि कोई सुई भी गिरती तो गूंज पैदा होती तायफ और खान के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था वो जिसे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब हुआ क्या है नताशा रुहेल से धीमी आवाज में कुछ पूछ रही थी और वो आहिस्ता से जवाब में कुछ बता रहा था नताशा उसकी बात सुन के जरा से मुस्कुराई और फातिहाना निगाहों से उसे देखा और कहा I guess so drawing room में मौजूद नफूस में वो वाहिद थी जिसे उस खबर ने बहुत महफूज किया था क्या करता है वो आर्मी में क्या रैंक है उसका जाहिर चचा वो पहले थे जिन्होंने सवाल किया शायद उनके जहन ने इस बात को कबूल कर लिया था मेजर है इससे पहले कि वो जवाब देती जवाब किसी और ने दिया था न उसने न फूफो ने हया हाँ बेख्तियार चौंकी सुलेमान साहब अब हैरान होने की बारी उसकी थी उसके लफ्ज जरा से खुल गए और आंखों की पुतलियां फैल गईं। अब्बा को पता था अब्बा को कब से पता था उसने फूफो की तरफ देखा वो भी हैरान हुई थी क्या तुम्हें मालूम था तायफुरकान को झटका लगा जी काफी अरसे से पता था उन्होंने कहते हुए हया को देखा जैसे कह रहे हो कि तुम वाहिद नहीं हो जिसे यह बात मालूम थी मैं इस शहर में रहता हूं और मेरे अपने भी सोर्सेज हैं मुझे काफी अरसे से पता था और मुझे उस पर इसी बात का गुस्सा था कि क्या था कि अगर वो हमें बता देता हम उसके अपने थे दुश्मन तो नहीं थे हया ने बेख्तियार रुहेल की तरफ देखा रुहेल ने इस बात में सर हिलाया तो यही बात थी जिसके लिए अब्बा उससे बर्गिश्ता रहते थे वो लड़की वाला मामला नहीं था वो ये बात थी रुहेल को भी पता था अब्बा को भी पता था नताशा को शक था बस एक वही बेवकूफ थी जो तीन महीने उसके पजल बॉक्स की पहेलियां ढूंढती रह गई काश वो उन सबसे पहले पूछ लेती हैरत है ताया ब बमुश्किल कह पाए वो अभी तक बेयकीन थे उसे कभी तो चाहिए था कि हमें बता दे वो बताना चाहता था मगर उसकी जॉब की कुछ मजबूरियां थी कि वो नहीं बता सका आप तो जानते हैं कि ऐसे जॉब में मुश्किल हो जाती है बहरहाल उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ सवीन फूफो ने बहुत सुकून से कहा था उनके चेहरे से जाहिर नहीं होता था मगर वो मुतमिन थी बहुत मुतमईन तुम्हें किसने बताया फातिमा अभी तक हैरान थी कभी उसे देखती कभी सुलेमान साहब को जैसे समझ ना पा रही हो कि उन्हें इस बात पे खुश होना चाहिए या नहीं जिहान ने उसे मुझे ही बताना चाहिए था ना उसने शाने उछाते हुए जवाब दिया बस वो एक जवाब हर जवाब पे भारी हो गया सहमत आई आबदा चची के मायने खेज निगाहों तंज ताने के नश्तरों हर शेर को अपना जवाब मिल गया वो वापस पलटी तो देखा डाइनिंग रूम में मौजूद लड़कियां उसे उन्हीं शशदर और हैरान निगाहों से देख रही थी हाँ खबर बड़ी थी मगर जल्द ही वो उसे कबूल कर लेंगे अगर वो आया तो पता नहीं वो उसके साथ किस किस्म का सलूक करेंगे मगर वो आए तो सही कब आएगा वो नहीं जानती थी अलबत्ता वो ये जानती थी कि इस जंग में जहान अकेला नहीं होगा वो हमेशा उसके साथ होगी वो अपने कमरे में लैपटॉप के आगे बैठी तुर्की तो की तस्वीरें देख रही थी जब उसका मोबाइल बजा स्क्रीन को देखते हुए उसने फोन उठाया और नंबर देखते हुए जैसे अंदर तक कड़वाहट घुल गई वलीद जाने ये कब उसकी जान छोड़ेगा चल लम्हे वो जलती बुझती स्क्रीन देखती रही उठाए या नहीं मगर उस आदमी से कुछ वईद नहीं था उठाना ही पड़ेगा उसने सब बटन दबा के फोन कान से लगाया हेलो मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं क्या तुम पांच मिनट में बाहर आ सकती हो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके दबा दिया क्या तुम इधर क्या करने आए हो वह हैरान परेशान सी खड़ी हुई फिर कमरे से बाहर निकली वो बैरूनी दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि सीढ़ियों की तरफ जा रही थी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है वो आर्किटेक्ट वाला मसला अभी हल नहीं हुआ और मैं जानता हूं तुम उसे हल करवाओगी मैं उस दिन पिज्जा हट में वेट करता रहा मगर तुम नहीं आई और अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है जब तुम्हें मेरी बात को संजीदगी से सुनना चाहिए और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं आऊंगी तुम मुझे क्या समझते हो तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारी इन गिदड़ भपकियों से डर जाऊंगी ग्रो अप वलीद लहजे में सख्ती रखते हुए वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी उसने टेरिस का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर आई मैंने फोन तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए नहीं किया तुम बाहर आओ मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है बस पांच दस मिनट लगेंगे ओके कॉल काट दी गई उसने शौकजदा अंदाज में बंद फोन को देखा और फिर तेजी से आगे आई छत पे कोने में पड़े झूले के पीछे से उसने मुंडेर पे से झांका बाहर रात सियाह थी कहीं कहीं स्ट्रीट पोल जल रहे थे घर के गेट से जरा दूर वलीद की सियाह अकॉर्ड खड़ी थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठा स्टेयरिंग व्हील पे हाथ रखे मुंतजर साउंड के गेट की तरफ देख रहा था हया के अंदर तूफान से उठने लगा बेबसी भी थी गुस्सा भी था यह आदमी किसी तरह उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था पता नहीं कुछ लोगों को अल्लाह का खौफ भी नहीं होता किसी की कमजोरी हाथ लगने पे वो खुद को खुदा क्यों समझने लगते हैं मगर नहीं ऐसे खुदाओं से ऐसे ब्लैक मेलरों से निपटना उसे अच्छी तरह आता है वो मुड़ी और टेरेस पे रखे उन मसनू पौधों की तरफ आई जो बड़े बड़े गमलों में रखे थे गमले बड़े थे इसलिए टहनियों को खड़ा रखने के लिए उन्हें मिट्टी के बजाय छोटे बड़े पत्थरों से भरा गया था उसने एक गमले से एक वजनी सा पत्थर उठाया और वापस मंडेर तक आई वलीद अभी तक मुंतजर निगाहों से गेट की तरफ ही देख रहा था जैसे उसका ख्याल था कि उसकी ब्लैकमेलिंग में आकर वो अभी गेट से आती दिखाई देगी और एक दफा फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाएगी मोमिन एक सुराख से कभी दो बार नहीं डसा जाता वो इतनी कमजोर तो नहीं थी कि उसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से उसके साथ बैठ जाती वो और होती होंगी कमजोर लड़कियां जो ब्लैकमेलिंग से घबरा जाती होंगी नहीं अगर उसने जन्नत के पत्ते थामे थे तो अल्लाह उसे रुसवा नहीं करेगा ये वादा उससे जिहान ने किया था मगर जिहान तो इस वक्त नहीं था जो अपना वादा निभाता उसे खुद ही कुछ करना था उसने एक नजर हाथ में पड़े पत्थर को देखा और एक नजर नीचे खड़ी गाड़ी को लम्हे भर के लिए सारी बातें सैलाब की तरह उमट उमट कर उसके जहन पे छाती गईं। वलीद की ब्लैकमेलिंग उसकी बदतमीजियां उसकी हर वो हरकत जिसने उसे जहनी कूफ में मुबतला कर रखा था और फिर उसने खींच कर वो पत्थर उसकी गाड़ी पे मारा अंदाजा उसने विंड स्क्रीन का किया था मगर वो बोनट पिल्लक कर नीचे गिरा वलीद ने चौंक कर इधर उधर देखा और इससे पहले कि वो ऊपर गर्दन करता हाया पीछे हो गई ये नहीं था कि वो उसके सामने आने से डरती थी बस उसने स्काफ नहीं ले रखा था गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई और टायरों की रगड़ हया ने हैरत से मुंडेल के सुराख से नीचे देखा वलीद की गाड़ी दूर जाती दिखाई दे रही थी इतना बुजदिल निकला वो बस एक पत्थर से डर गया उसको वाकई हैरत हुई थी यह शायद हर ब्लैकमेलर इतना ही बुजदिल इतना ही कमजोर और इतना ही घटिया होता है हम्म। तनफुस और हवासों को काबू करती वो वापस आई कमरे में आकर उसने लैपटॉप पे लगी तस्वीरें बंद कर दी दिल इतना उचाट हो गया था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे वो बदनीयत आदमी पता नहीं कब और किस तरह उसका पीछा छोड़ेगा क्या सारी जिंदगी वो यही करता रहेगा वो कब तक उसको पत्थर मार कर अपने से दूर रखेगी किसी दिन अगर वो वाकई उनके घर पहुंच गया और वो सीढ़ी अब्बा या किसी को दिखा दी तो फिर क्या नतज निकलेंगे वो अपनी इज्जत खो देगी मकाम खो देगी वलीद के हाथ से मिलने वाली सीढ़ी सब कुछ खराब कर देगी इरम और वलीद इन दोनों को अल्लाह का कोई खौफ नहीं था वो बेदिली से बेड पे आके बैठ गई समझ नहीं आ रही थी क्या करे बाहर लाउंज में अम्मा और पुप्पो के साथ भी बैठने का दिल नहीं कर रहा था फूफो तो वैसे भी इन दो दिनों में सबके सवालों के ही जवाब दे रही थी जहान ने कब क्या और कैसे जो कुछ किया उसे उन चीजों से दिलचस्पी नहीं थी वो तो अपनी तरफ से बम फोड़कर फारिग हो चुकी थी आगे फूफो जाने और उनका बेटा जब दिल ज्यादा उदास हुआ तो वो वजू करके आई और कुरान खोल के बेड पे बैठ गई हाँ उसने जहान से वादा किया था कि वो रोज कुरान पढ़ेगी मगर अभी तक नहीं पढ़ सकी थी अब वो पढ़ा करेगी मगर कहाँ से शुरू करे बहरहाल उसने सूरह नूर निकाली ये वो सूरत थी जिसने हर चीज शुरू की थी जिसने उसे एक और दुनिया में पहुंचाया था अब उसे एक दफा फिर ये पढ़नी थी हाँ ऐसे कहती थी कुरान में हर चीज का जवाब होता है हर दुख का मदावा हर परेशानी की तसल्ली हर फिक्र का हल वो सूरह नूर पढ़ने लगी आहिस्ता आहिस्ता दिल पे छाई तंगी कुरान पे लिखे स्याह हरूफ से कम होने लगी स्याह हरूफ उसका स्याह मोती जो रुमाल में रखा था और साथ कंकर भी उसके दिल में दूसरे ख्याल आने लगे उसने सर झटका और आयत पे तवज्जो दी वो लोग जो तुम में से ईमान वाले हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनको वो ज़रूर ज़मीन में जानशीन मुकर करेगा जैसे कि उनसे पहलों को मुकर किया और उनके लिए जिस दीन को पसंद किया है उसे ज़रूर मुस्तहकम करेगा और उनके खौफ ज़रूर अमन में बदल देगा बस शर्त यह है कि वो मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएं। लम्हे भर को कमरे में रोशनी सी हो गई सोने के पतिंगे से हर सू गिरने लगे थे नूर था ऊपर नूर के वो अल्फाज बहुत ही खूबसूरत बहुत ही पुरुद थे क्या वाकई ऐसा हो सकेगा क्या वाकई उसे अपने दीन की सबाती नसीब हो सकेगी कभी कभी कुरान की बातें इतनी उम्मीद दिखाई देती थी कि अपनी नाउमीद जिंदगी से उसे रिलेट करना मुश्किल लगता था मगर मरियम खानम ने कहा था कि यकीन से मांगेंगे तो ज़रूर मिल एक दफ़ा इन आयत पे यकीन करके तो देखे कौन जाने उसने कुरान बंद करके एहतियात से बुक शेल्फ पे रखा और बेड पे आगे आंखों पे बाजू रखे लेट गई अभी वो सिर्फ सोना चाहती थी थकन बहुत ज्यादा हो गई थी बहुत ज्यादा सुबह वो उठी तो पहला ख्याल उन आयात का आया था हाँ कमरे में अब सिर्फ सूरज की रोशनी थी और सुबह की ठंडी हवा रात वाली रोशनी अब उधर नहीं थी इंसान उसी ख्याल के साथ उठता है जिसके साथ वो सोया था शायद इसीलिए इंसान जिस ईमान के साथ मरेगा उसी के साथ उठाया जाएगा दरमियान का दौरानिया बेमायने था वो बाल लपेटती बाहर आई सारा घर अभी सो रहा था लाउंज और किचन के बीच आधी खुली दीवार से नूर बानो काम करती नजर आ रही थी पस मंजर में कोई मानूस गैर मानूस की आवाज आ रही थी नूरबानो नाश्ता मैंने नताशा बाजी के लिए मैंगो स्लश बनाया था आप पियेंगी वो सर हिलाती हुई आगे आई काउंटर से ग्लास उठाया और स्लश वाले जग को उसमें उंडेला कूटी हुई बर्फ और जूस की धारें उसमें गिरने लगी फिर वो पास रखी कुर्सी पर बैठी और ग्लास लबों तक ले जाते हुए यूं ही सर उठाया एक लम्हे के लिए सारी दुनिया साकित हो गई हर शेर ठहर गई काउंटर से ग्लास उठाया और स्लश वाले जग को उसमें उंडेला कूटी हुई बर्फ और जूस की धारें उसमें गिरने लगी फिर वो पास रखी कुर्सी पर बैठी और गिलास लबों तक ले जाते हुए यूं ही सर उठाया एक लम्हे के लिए सारी दुनिया साकित हो गई हर शेर ठहर गई बस एक चीज थी जो हरकत कर रही थी गोल गोल दायरे में घूमती हुई कांच और लकड़ी के टकराने की मध्यम आवाज कांच की गुलाब की पंखड़ियां सिल्वर रॉड्स लबों तक जाता गिलास वाला हाथ तेजी से नीचे आया था आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैली लाउंज और किचन के दरमियान दीवार के एन ऊपर उसका विंड चाइम हवा से झूल रहा था ये ये यहां कैसे आया ये किसने लगाया उसने हैरत और शौक से नूर बानो की तरफ देखा काम करती नूर बानो ने मुड़कर विंड चाइम को देखा उसकी आंखों में अचंभा उभरा फिर उसने नासमझी से नफी में सर हिलाया मुझे नहीं पता बाजी मैंने तो अभी देखा है ये तो मेरा है ये तुर्की में मुझसे गुम गया था ये यहाँ कैसे आया ये यहां किसने लगाया वो नूर बानो से कम और खुद से ज्यादा बातें कर रही थी नूर बानो हिरासा सी हो गई मैं तो पहले ही कहती थी बाजी कि हमारे घर में जिन है मगर वो सुने बगैर तेजी से किचन से बाहर आई सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद था वो स्लश का ग्लास हाथ में पकड़े नंगे पैर तेज तेज सीढ़ियां चढ़ने लगी पाँव में लगे बैंडेज अब खुल चुके थे मगर जख्मों के निशान वहीं थे एक दो तीन चार कदम जैसे जीनों पे नहीं उसके दिल पे पड़ रहे थे सांस तेज तेज चल रहा था उसे नहीं पता वो चंद सीढ़ियां चंद सदियां क्यों बन गई थी जैसे यह फासला कभी खत्म नहीं होगा वो फूले तनफुस के साथ ऊपर आई और धड़कते दिल से उस आखिरी कमरे का दरवाजा धकेला गेस्ट रूम के बेड पे एक खुला हुआ बैग रखा था जिसमें से शर्ट निकालते हुए वो बेड के साथ जरा झुका हुआ खड़ा था आहट पे उसने सर उठाकर देखा हयात चौखट पे स्लश का ग्लास उठाकर खड़ी फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी धीरान उसे देखकर चंद लम्हे कुछ नहीं कह पाया फिर धीरे से मुस्कुराया शर्ट बैग पे रखी और कदम कदम चलता उस तक आया नीली जीन्स और सर्फ शर्ट में वो बहुत फ्रेश लग रहा था मरहबा हया से चंद कदम दूर रुक कर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को खम देते हुए सलाम किया हया चंद लम्हे वैसे ही साकेत निगाहों से उसे देखती रही और फिर फिर उसके अत खुले लब भीज गए पेशानी के रग तन गई और हैरत जदा आंखों में यक यक गुस्सा दराया एकदम से उसने स्लश से भरा ग्लास ढिहान पे फेंक दिया तुम वहां मरने के लिए मुझे छोड़ गए थे मैं वहां कितनी दफा मरी हूं तुम्हें पता ही नहीं है और अब तुम आकर कहते हो मरहबा वो एकदम फट पड़ी थी स्लश जिहान की शर्ट पे गिरा था वो एकदम पीछे हुआ पहले उसने अपनी शर्ट को देखा और फिर हया को जैसे उसे यकीन ना आया हो कि हया ने ये किया है जैसे उसे यकीन ना आया हो कि एक दफा फिर हया ने ये किया है हया वो लम्हे भर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया कुछ मत कहो तुम तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है तुम क्या समझते हो मुझे बेवकूफ हूँ जो मैं नहीं समझती कि तुमने आयशे को फोन करके खुद अपनी मुखबरी करवाई तुमने अपने आप को खुद पकड़वाना चाहा या शायद पता नहीं तुम वहाँ गए भी थे या नहीं मैं नहीं जानती वहाँ कौन था मगर मैंने वहाँ बारूदी सुरंगें फटते देखी मैंने वहाँ पे गोलियां चलते सुनी मैंने वहाँ पे धुआं देखा मैं नहीं जानती वहाँ पर क्या हुआ मगर जो भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा जहन था मैं जानती हूँ जिहान तुम हमेशा चीजें प्लान करते हो मगर तुमने कहा था कि तुम उस दफा कुछ प्लान नहीं करोगे लेकिन तुमने किया क्या था अगर तुम मुझे बता देते मैं कितना परेशान रही मैं कितनी तड़पी मैं कितनी बेसुकून रही इन चंद दिनों में अंदाजा नहीं है तुम्हें वो वहीं बेड के किनारे पे बैठी और फिर एकदम हाथों में मुंह छुपा कर रोने लगी जिहान ने एक दफा फिर गर्दन झुकाकर अपनी गीली शर्ट को देखा और फिर फर्श पे गिरे प्लास्टिक के ग्लास को शुक्र है कि वो प्लास्टिक का था सो टूटा नहीं तुमने क्या किया उस वक्त मैं नहीं जानती मगर जो भी किया वो बहुत बुरा था अगर वहां मेरे दिल को कुछ हो जाता मैं शौक से ही मर जाती तो तुम क्या करते मगर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो रोते रोते कह रही थी अगर तुम्हारी याददाश्त ठीक से काम कर रही है तो तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था फौरन वहां से चली जाना अगर तुमने सब कुछ देखा है तो इसका मतलब है तुम वहीं पर थी तुमने मेरी बात नहीं मानी हया ने एकदम से गीला चेहरा उठाया मैं चली भी जाती तो कितना दूर जाती चंद मीटर दूर ही तो खड़ी थी हमारी जीप क्या मुझे वहां तक सुरंगें फटते धमाके और गोलियों की आवाज ना आती वो एक तारीख खामोश रात थी और तुम जानते थे कि मुझे आवाज आएगी इसीलिए तुमने मुझे कहा था कि मैं सरहद तक ना जाऊं क्या तुम वाकई सरहद के पार गए थे क्या पता तुम गए ही ना हो मुझे अब तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं रहा ध्यान कितने दिन वो मुस्तरब बेचैन और दिलगिर रही थी और अब कितने मजे से वो आकर कह रहा था मरहबा यानी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी यानी कि तुम हमेशा अपनी ही मर्जी करती हो अगर मैं अपनी मर्जी करूं तो तुम गुस्सा करती हो और जिहा ने सर झुकाकर अपनी गीली शर्ट को देखा क्या कुछ रह गया है जो तुमने मेरे ऊपर नहीं तोड़ा तो एक ही दफा तोड़ लो ताकि ये सिलसिला खत्म हो जाए वो खफगी से बोला हया ने उसकी भीगी शर्ट को देखा उसे जरा भी अफसोस या पछतावा नहीं था फिलहाल वो इसी काबिल था मैंने तुम्हें कहा था कि तुर्की और शाम का बॉर्डर सबसे आसान बॉर्डर है मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि वो हमें नहीं पकड़ सकते जब तक हम खुद ना चाहें आसान बॉर्डर होने का ये मतलब नहीं होता कि आप मुंह उठाकर सरहदी बाढ़ से चले जाएं। आसान बॉर्डर का मतलब ये था कि ऐसे बॉर्डर पे सरहदी फौज को डॉच देना आसान होता है वो कहता हुआ बाथरूम की तरफ गया चंद ही लम्हों बाद वो शर्ट के गिरबान तौलिए से साफ करते हुए वापस आया था हम तुर्की और शाम का बॉर्डर इसी तरह क्रॉस करते हैं कमांडर शिया था इसलिए मुझे ये चाहिए था कि मैं उसे ईरान से कॉल करवाता और ईरान में मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन आयशे थी आयशे ने उन्हें फोन करके एक ऐसे क्रिमिनल का बताया जिसे वो पकड़ना चाह रहे थे हालांकि वो आदमी इससे हफ्ता पहले ही तुर्की से शाम जा चुका था लेकिन उन सिक्योरिटी फोर्सेस वाले गधे को मालूम नहीं था शर्ट साफ करके उसने गर्दन के ऊपर जूस के कतरे भी तौलिए से पोछे फिर सर उठाकर गिला आमेज निगाहों से हया को देखा और अगर तुम किसी पे कुछ गिराने से पहले उसकी बात सुन लिया करो तो ज्यादा बेहतर होगा मैंने जिस क्रिमिनल के बारे में उन्हें बताया था वो वहां पर जा ही नहीं रहा था जो बंदा मेरी जगह बॉर्डर से उस पोस्ट तक गया उसको पैसों की जरूरत थी जब वो उसे पकड़ लेंगे तो छह माह उसे जेल में रखेंगे और फिर छोड़ देंगे और इन छह माह में उसके घर वालों को बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा ये सिर्फ एक डाइवर्जन था जो अपनी तरफ से हम सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं ताकि वो मुखबरी की गई चौकी की तरफ अपना फोकस रखें और ऐसे में उनकी तवज्जो किसी करीबी चौकी से हट जाया करती है और हम उनकी उसी बेदहानी का फायदा उठाकर बॉर्डर के पार चले जाया करते हैं तुर्की और शाम को बॉर्डर सब इसी तरह क्रॉस करते हैं एक बंदा पकड़वाते हैं और पूरी की पूरी फैमिली करीब ही कहीं दूसरी जगह से बॉर्डर क्रॉस कर लिया करती है और जो बारूदी सुरंग फटी वो उन लोगों से बहुत दूर थी सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के लिए किया था मैंने ये तो इसीलिए उसके जूतों का रुख बाएं तरफ था वो बॉर्डर की तरफ नहीं जा रहा था उसने जाने ही बाएं तरफ था कुछ ना कुछ तो जहान ने उसे सिखाया था मगर उस सीखी हुई बात को वो पहले अप्लाई कर लेती तो इतनी परेशानी ना होती अगर मैं तुम्हें बता देता कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले तैयार हैं बारूदी सुरंग फटेगी गोलियां चलेंगी तो क्या तुम मुझे वहां जाने देती तुम परेशान हो जाती तुम इतने दिन परेशानी में गुजारती कि कहीं मेरा डाइवर्जन नाकाम तो नहीं हो गया कहीं ये ना हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को अंदाजा हो गया हो और उन्होंने आसपास की फोर्स बढ़ा दी हो तुम इसी तरह की बातें सोचती रहती और परेशान होती इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया मगर नहीं वो हया सुलेमान ही क्या जो मेरी बात मान ले जो अपनी अकल से बेअकली वाले काम ना किया करे गीले तौलिए को सोफे की पुष्ट पे डालते हुए वो बरहमी से कह रहा था हया ने भीगे रुखसार हथेली की पुष्ट से साफ किए और वो लड़की कौन थी जिसके साथ एक दफा अब्बा ने तुम्हें देखा था अब मत जाहिर करना कि तुम्हें याद नहीं है वो हम्म, हाँ वो वो आयशे थी आयशे तुमसे कभी इतनी बेतकल्लुफ हो ही नहीं सकती सच बताओ नहीं इनफैक्ट मुझे याद आया वो मेरी सेक्रेटरी दीमत और वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है वो असल बात कभी नहीं बताएगा अब भी कुछ बातें थीं जो वो उसे नहीं बताता था मगर फिल वक्त वो उसे कुछ बताना चाहती थी मैं वहां तुम्हारे लिए गई थी जिहान मैं तुर्की तुम्हारे लिए गई थी जिहान के खफा चेहरे के तने हुए नुकूश जरा ढीले पड़े और फिर एक मुस्कुराहट उसके लबों पे आ गई वेरी गुड मैं यही सुनना चाहता था वो बहुत महफूज हुआ था मैं हमेशा से जानता था कि तुम वहां कपादोकिया देखने के लिए नहीं आई कपादोकिया की बात कौन कर रहा है जहान उसने उकता कर टोका तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने मुझे कपादोकिया खुद बुलाया था वरना तुम कभी मुझसे महसन वाली बात ना कहते तुम चाहते थे कि मैं वहां आऊं लेकिन मैं कपादोकिया की बात नहीं कर रही वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और जब बोली तो उसकी आवाज पहले से हल्की थी मैं तुर्की तुम्हारे लिए गई थी जहान मैंने सबांजी का स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए लिया था मैं तुमसे मिलना चाहती थी मैं तुमसे उन सारे गुजरे माहो साल का हिसाब लेना चाहती थी जिनमें मैंने तुम्हारा इंतजार किया मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने तुम्हारा नाम कब सुना मैं नहीं लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारा नाम हमेशा मेरे नाम के साथ रहा था अब तुम इसको मोहब्बत कहो या जो भी कहो मुझे नहीं पता मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे बगैर रहने का कभी नहीं सोचा ना तुम मेरे बगैर रह सकते हो मेजर अहमद आखिर में वो भीगी आंखों से मुस्कुराई जिहान ने एकदम से उसे देखा और फिर दरवाजे को आहिस्ता बोलो कोई सुन लेगा हालांकि मुस्कुराहट जरा सी सिमटी बेख्तियार उसने थूक निकला उफ एक बात तो रह ही गई सुन भी लेगा तो क्या होगा अनजान बनते हुए उसने शाने झटके मैं नहीं चाहता अभी किसी को पता चले समझा करो ना वो जरा सा झिझलाया था उस रोज जब ताया फुरकान वगैरह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और तुम्हें इल्जाम दे रहे थे तो मैंने वो जरा सीखन खारी मैंने हर चीज बता दी उनको बात के अख्ताम पर उसने जिहान का चेहरा देखा उसकी आंखों में पहले अचुंबा उतरा और फिर तुमने सबको क्या बता दिया वो बुरी तरह से चौंका वही जो सच था वही जो तुम्हें बहुत पहले इनको बताना चाहिए था मगर तुम में हिम्मत ही नहीं थी सो मैंने सोचा थोड़ी सी हिम्मत मैं कर लूं और मैंने बता दिया बस वो जितनी लापरवाही से कह रही थी उसके दिल की तेज होती धड़कन उसके बरक्स थी जहान किस तरह रिएक्ट करेगा उस पर तो उसने सोचा ही नहीं था तब यकीन जो नहीं था कि वो आ जाएगा मगर तुमने ऐसा उफ हया उफ उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे वो मुतफक्कर सा नजर आने लगा था पता नहीं अब सब कैसे रिएक्ट करेंगे एक दफा फिर नया इशू मैं मजीद इशू अफोर्ड नहीं कर सकता वो झिझलाया था तुम्हें किसने कहा कि वो इशू बनाएंगे वो कोई इशू नहीं बनाएंगे जिहान तुम्हें शायद एक बात नहीं पता उसके दिल की धड़कन नॉर्मल हुई और झुककर फ्रेश से प्लास्टिक का ग्लास उठाया फिर सीधी होकर मुस्कुराते हुए बोली तुम्हें दुनिया की हर तहजीब हर मुल्क हर इलाके का पता होगा तुम्हें बहुत सी जबानें आती होंगी मगर एक जगह तुम गलती कर गए हो तुम पाकिस्तान में कम रहते हो ना तुम्हें पता ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी भले मार्शल के जितने भी खिलाफ हो जाएं हमें अपने जर्नेलो डिक्टेटर से कितने ही शिकवे क्यों ना हो हम उनकी पॉलिसी से कितना ही अख्तराफ क्यों ना करें मगर एक बात हमेशा से तय है कि हम अपनी फौज से वाकई मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे जहान ने सर उठाकर उसे देखा फिर उसके मुतफक्कर चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई और क्या इस हम में तुम भी शामिल हो ये एक पहेली है और इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा अब तुम काम करो और मैं जरा आयशे को बता दूं कि तुम वापस आ गए हो कौन आयशे वो जैसे बहुत उलझ कर बोला वो ठहर गई रीढ़ की हड्डी में सनसनी खेज लहर दौड़ गई मेरा मतलब था फूफो को बता दूं ऑफ कोर्स तुम्हारी तरह मैं भी किसी आयशे को नहीं जानती हया ने बात में सर हिलाया यानी अब उसे हमेशा ये बात याद रखनी होगी आयशे बहारे का बाब बंद हो गया था क्या अब तुम्हें कहीं जाना होगा या तुम घर पे रहोगे क्यों नहीं जाना होगा आज तो वैसे भी मेरा यौम क़यामत है यौम हिसाब एक एक पाई का हिसाब देना होगा उन तीन साल का हिसाब देते हुए भी एक उम्र निकल जाएगी वो वापस बैग की तरफ मुड़ने लगा मगर एक दफा फिर अपनी गीली शर्ट को देखकर रुका और ये आखिरी दफा हुआ है ठीक उसने हया के हाथ में पकड़े ग्लास और अपनी गीली शर्ट को देखते हुए तंबीह की हया ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट अपने लबों पर रोकी आई एम सॉरी बस मैं गुस्से में आ गई थी फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाती वो तेजी से बाहर निकल गई जो पहली चीज उसने ध्यान पे गिराई थी वो भी स्लश था मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज का गिराया हुआ स्लश वो आखिरी चीज होगी जो उसने ध्यान पे गिराई है या नहीं अलबत्ता यह तय था कि इतनी आसानी से तो वो अपनी आदत नहीं छोड़ने वाली सारे घर में खुशियां उतर आई थी वो खुशियां जिनका उसने बहुत इंतजार किया था पिछले साल दिसंबर में सबान जी के मेल के बाद इन छह सात माह में पहली दफा वो दिल से खुश हुई थी बहुत मुश्किल से ये खुशी उसको मिली थी और वो इसको पूरा पूरा देना चाहती थी अब्बा और फूफो ने फैसला किया था कि जहान और उसकी मंगनी का फंक्शन भी रुहेल और नताशा के वलीमे के साथ रखा जाए यानी उसे भी दुल्हन बनना था हाँ रुखसती उसकी डिग्री खत्म होने के बाद ही की जाएगी फंक्शन इस संडे को था और जब से ये डिसाइड हुआ था सारे घर में अफरा तफरी और रौनक से लग गई थी ध्यान ज्यादातर घर से बाहर रहता लेकिन जब भी आता उसका इस्तेबाल हमेशा एहतराम और इज्जत से किया जाता उसकी तो बरक्स ताया अब्बा अब्बा सायमत आई ने उससे कुछ नहीं पूछा था कोई गिला या कोई ताया नहीं दिया था जिसने पूछना था फूपो से पूछ लिया था शायद उससे पूछने की किसी में हिम्मत ही नहीं हुई ताया फुरकान में भी नहीं वक्त भी कैसे बदल जाता है हाँ अलबत् वो उससे उसकी जॉब के बारे में उसके कैरियर के बारे में और उसके आने वाले कामों के बारे में ज़रूर पूछा करते थे और वो उनके सामने बैठा धीमे लहजे में मुख्तसर से जवाब दे रहा होता था एक लिहाज का था जो सब ने अपने और उसके दरमियान खड़ा कर दिया था पता नहीं वो उस सब से खुश भी था या नहीं मगर वो बहुत खुश थी उस वक्त भी किचन में बैठे मेहमानों की लिस्ट बनाते हुए वो मुसलसल खुद ही से मुस्कुरा रही थी उसके मुकाबल चीज केक के आमेजे में चम्मच हिलाती इरम ने दुजीदा निगाहों से उसे देखा तुमने फंक्शन का जोड़ा ले लिया जब इरम से उसकी मुस्कुराहट सही ना गई तो उसने पूछ ही लिया उसे फातिमा ने स्पेशल चीज केक के लिए बुलवाया था क्योंकि वो फैमिली में सबसे अच्छा चीज केक बनाती थी उसकी बात पर हया जरा सी चौंकी फिर नफी में सर हिलाया ऑर्डर तो दे दिया था मगर अभी पिक नहीं किया हाँ वैसे काफी लकी हो तुम है ना इरम ने चम्मच गोल गोल हिलाते हुए कहा कितनी आसानी से बैठे बिठाए इतना हैंडसम शोहर तुम्हें मिल गया बैठे बिठाए हया ने ताजुब से सोचा फिर धीरे से नफी में सर हिलाया उसके पाओ पे जख्मों के निशान अभी मौजूद थे बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलता इरम नहीं जानती थी कि उस खुशी को पाने से पहले वो कितने सहरा नंगे पाओ आबला पा चली थी वो कितना जली थी कितना सहा था उसने इरम तो कुछ भी नहीं जानती मगर उसे जताना बेकार था उस फंक्शन और उसकी गहमा गहमी में हया इतनी खुश थी कि उसने वीडियो वाली बात को दोबारा नहीं छेड़ा था शायद इरम अब जिहान के आने के बाद एहसास करके वो वीडियो खुद ही वापस ले ले शायद कुछ ना कुछ वो कर ले लाउंज में पुप्पो और अम्मा वलीमे के इंतजाम डिस्कस कर रही थी हया के लबों पे फिर से मुस्कुराहट उमड़ आई अम्मा नताशा आ गई शॉपिंग से हाँ अभी अभी आई है साड़ी लेकर मुझे दिखाकर अंदर रखने गई है फातिमा ने हल्का सा सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रुहेल का कमरा ऊपर था अलबत्ता फातिमा के चेहरे पे नाखुश सा तासुर था हया जाओ नताशा को बुला लाओ पुप्पो को भी दिखा दे साड़ी तुम्हारी पुप्पो अंदर थी जब वो मुझे दिखा रही थी अम्मा ने याद आने पे उसे पुकारा उनके चेहरे पे अलबत्ता दबी दबी सी कुड़हन थी पता नहीं क्या बात थी पूछने का इरादा तर्क करके वो पेन कागज वहीं छोड़कर उठ गई जहान का कमरा सीढ़ियों से ऊपर रहदारी में कोने पे था तो रोहेल का दूसरे कोने पे वो आखिरी जीना चढ़ के ऊपर आई तो देखा जहान और नताशा रुहेल के कमरे के सामने खड़े हंसते हुए कुछ बात कर रहे थे नताशा के हाथ में तीन चार बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स थे और वो हाथ हिला हिलाकर खालिस अमरीकी अंदाज में तेज तेज बोलती कुछ बता रही थी वो इतने फासले से आवाज तो नहीं सुन सकती थी कि वो क्या कह रहे थे मगर खुश मिजाजी शनासाई उसके आईब्रो तन गए इतने हंसकर कभी मुझसे तो बात नहीं की हम्म। नताशा उसने पुकारा दोनों ने भी इख्तियार मुड़कर देखा जिहान इस्तकबाली अंदाज में जरा सा मुस्कुराया मगर वो एक ना, नाराज निगाह उस पर डालकर आगे आई नताशा अम्मा बुला रही हैं फुप्पो को कपड़े दिखा दो ओके नताशा ने एक नज़र ध्यान को देखकर असबात में सर हिलाया और नीचे चली गई वो चुभती हुई निगाहों से नताशा को देखती हुई जहान की तरफ पलटी क्या बात हो रही थी अपनी बचपन की सहेली से वो जरा सा हंस दिया नहीं भाई मैं तो तुम्हारी वजह से इतना खुश अखलाक हो रहा था तुम्हारी भाभी है ना मेरी वजह से तुम कुछ नहीं करते और अगर कुछ करना है तो शाम मेरे साथ फंक्शन के कपड़े लेने आ जाओ अगर तुम्हें नहीं पसंद हुए तो बदल लेंगे नताशा को भूल कर उसे कपड़ों की बात याद आ गई थी एक तो पता नहीं हमारी मंगनी कितनी दफा होगी वो इस फंक्शन के आइडिया से उकता जाता था अब हो रही है तो होने दो ना क्या तुम आज शाम चलोगे नहीं शाम मैं जरा बिजी हूँ कल चलूंगा प्रॉमिस वो नीचे आई तो फुप्पो अकेली बैठी थी अम्मा वहां नहीं थी ना ही नताशा नताशा सायमा भाभी की तरफ गई है उन्हें शॉपिंग दिखाने तुम्हारी अम्मा लॉन में है उसके पूछने पे फुप्पो ने बताया था ओके उसने सर पे दुपट्टा लिया और पोर्च की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई बट जरा सा खोला तो बरामदे में फातिमा और रुहेल रू बरू खड़े नजर आए फातिमा गुस्से और खफकी से रुहेल से कुछ बहस कर रही थी और वो आगे से कुछ कहने की नाकाम कोशिश कर रहा था ये पहनकर जाएगी वो वलीमे में हद होती है रुहेल वो घर में क्या क्या पहने नहीं फिरती मैं खामोश हो जाती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मुझे और तुम्हारे अब्बा को बुरा नहीं लगता मगर इस फंक्शन में हजारों लोग होंगे रुहेल कुछ एहसास है तुम्हें मगर अम्मा ऐसा क्या मगर अम्मा उसकी नहीं सुन रही थी शलवार कमीज लहंगा कुछ ले लेती भले सर पे दुपट्टा ना लेती तब भी खैर थी मगर ये स्लीवलेस बैकलेस बेहुदा सी साड़ी उठाकर ले आई तुम्हारी बीवी हमारे खानदान में कभी ऐसा लिबास पहना है किसी ने अम्मा क्या हो गया है हया भी तो स्लीवलेस पहन लेती है और अम्मा के तो मानो सर पे लगी तलवों पे भुजी मेरी बेटी का नाम मत लो वो एकदम गुस्से में आ गई थी मेरी बेटी जब घर से निकलती है तो अबाया पहनकर चेहरा ढांप कर निकलती है खानदान में कोई नहीं है जो मेरी बेटी के बराबर का हो मगर अम्मा पहले तो हया भी पहले की बात मत करो रुहेल हम हया की बात कर भी नहीं रहे हैं हम तुम्हारी बीवी की बात कर रहे हैं अच्छा ठीक है मैं बात करूंगा उससे वो जैसे जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला था मगर अम्मा कन्विंस नहीं हुई थी और भी कुछ कहने का इरादा रखती थी मगर हया दबे कदमों वापस पलट गई उसकी आंखों में नमी उतर आई दिल भर आया अभी कल ही तो जब वो शॉपिंग पे जाने के लिए धुले कपड़ों में से अबाया ढूंढ रही थी तो अम्मा झिझुलाकर कह रही थी कि हर वक्त इतना बुरका कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं होती लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अम्मा उसके बारे में कुछ और कह रही थी दिल से तस्लीम कर लेने और जबान से एतराफ कर लेने में फर्क होता है और वो फर्क अम्मा पाट नहीं सक रही थी वो वापस किचन की तरफ आई जहां इरम बैठी अभी तक आमेजी के साथ लगी थी नताशा भी उसी पल शॉपिंग बैग उठाए सीढ़ियां चढ़ती दिखाई दी थी हया ने काउंटर पर रखे डब्बे के ढक्कन को बंद करने से पहले एक दफा जोड़े को देखा और फिर जिहान के चेहरे को कैसा लगा तुम्हें उसने जरा इश्तियाक जरा फिक्रमंदी से पूछा पता नहीं उसका टेस्ट जिहान को अच्छा भी लगता है या नहीं हाँ अच्छा है वो शॉप में शायद उससे ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता था बस जरा से शाने उचकाए हया ने एक दफा फिर उस तहशुदा जोड़े को देखा हालांकि मंगनी और निकाह जैसे मौकों पर लड़कियां लाइट पिंक पिस्ता ग्रीन या हल्का नीला पहनना पसंद करती थीं। फिर भी उसने ये रंग मुंतखब किया था वो लंबा घेरदार पांव तक आता फ्रॉक था साथ चूड़ीदार पजामा सारा लिबास एक ही रंग में था ग्रे कलर और ग्रे कभी दरमियाना सा शेड ना बहुत हल्का ना बहुत गहरा पूरे फ्रॉक पर डायमंड और सफेद मोतियों का काम था ग्रे और सिल्वर का कॉम्बिनेशन फुप्पो उसको वाइट गोल्ड और डायमंड का सेट दे रही थी और उसकी मुनासिबत से उसको यह रंग सबसे बेहतरीन लगा था हया ने डब्बा बंद किया और उसे शॉपिंग बैग में डालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई जिहान उसके पीछे चलता हुआ बाहर आया क्या तुम्हें वाकई पसंद आया तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा था गाड़ी में बैठते ही वो जरा मुतफक्र से बोली नहीं मुझे वाकई पसंद आया बहुत अच्छा कलर था लेकिन इग्निशन में चाबी डालते हुए जहान ने जरा से शाने उचकाए लेकिन मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि कि क्या वो जानती थी कि वो बात को किस तरफ ले जा रहा है फिर भी उसने अनजान मनते हुए पूछा यही तुम इस लिबास के साथ मेरा मतलब है तुम अपना पर्दा कैसे कैरी करोगी दुल्हन बनकर वो शायद काफी देर से यही सोच रहा था हया के लबों पर एक हल्की सी इसरार भरी मुस्कुराहट उभर कर मादूम हुई कर लूंगी गाड़ी अब सड़क पे दौड़ रही थी और वो जरा सा मुस्कुराते हुए विंड स्क्रीन के पार देख रही थी क्या तुम इस कामदार लिबास के ऊपर बुरका लोगी या चादर वगैरह नहीं मैं बुरका नहीं लूंगी तो तुम क्या उसके काम वाले दुपट्टे से नकाब करोगी जिहान को कहते हुए भी ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी बहुत ही ऑकवर्ड नकाब नहीं कामदार दुपट्टे से नकाब और उसे शायद लगा था कि हया आगे से उसकी बात की तस्दीक कर देगी नहीं मैं दुपट्टे से नकाब तो नहीं करूंगी तो फिर तुम क्या करोगी हया ने आंखों में उसी मुस्कुराहट को सुमोए गर्दन मोड़ कर जेहान को देखा वो जैसे इस बात पे बहुत सोचने के बावजूद भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका था जेहान कुछ बातों में मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं तुम ही ने तो कहा था ना कि रास्ता होता है मैंने भी रास्ता निकाल लिया है अच्छा चलो देखते हैं तुम क्या करती हो वो उसकी बात पे महफूज सा होकर जरा समझ कर आया थोड़ी ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि गाड़ी घर के बजाय किसी और जानिब जा रही है क्या हम घर नहीं जा रहे उसने जरा तजब्जुब से पूछा पहले हमें कुछ उठाना है मैंने एक बेकरी पे कुछ ऑर्डर किया है वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए मोड़ काट रहा था हया को अचंबा हुआ बाहर रात हो चुकी थी और उन लोगों ने डिनर पर घर पहुंचना था ऐसा क्या ऑर्डर किया था तुमने शायद तुम्हें याद हो मैंने तुम्हारा एक जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ा था और हया का सांस लम्हे भर के लिए थमा क्या तुमने मेरे लिए जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है वो हैरत ज़दा ही तो रह गई थी तुम्हें लगता है मैं इतना फारिग हूँ मैंने सिर्फ एक बेकरी पे ऑर्डर दिया है और अब हमने उसे पिक करना है कल हमारी मंगनी तीसरी दफा हो रही है सो इससे पहले मुझे यह हिसाब बराबर करना है मुस्कुराहट दबाते हुए वो बोला था लेकिन तुमने खुद तो नहीं बनाया ना मगर पैसे तो मैं ही दे रहा हूं ना और ये बात करते हुए उस गरीब आदमी के चेहरे पे खफगी से मटाई हया बेसाख्ता गर्दन मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी वो नहीं चाहती थी कि जहान उसकी आंखों में आती मुस्कुराहट को देख पाए उस बेकर ने बहुत मेहनत से जिंजर ब्रेड हाउस बनाया वो उतना ही प्यारा था जितना हया का अपना जिंजर ब्रेड हाउस या पता नहीं क्यों उसे लगा कि ये वाला हाउस ज्यादा प्यारा था काउंटर पे ट्रे पे रखा वो खूबसूरत सा हाउस जिसके ऊपर अला बला कैंडीज जेली और आइसिंग से ड्रेसिंग की गई थी नहीं उसको पैक ना करें ये टूट जाएगा बहुत नाजुक है मैं इसको यूं ही उठा लूंगी हया ने एहतियात से जिंजर ब्रेड हाउस वाली ट्रे उठा ली कपड़ों वाला शॉपर तो वैसे ही गाड़ी में पड़ा था अब वो ट्रे को उसी तरह उठाए घर ले जाना चाहती थी अगर इस दफा ये टूटा तो ये तुम्हारी गलती होगी जिहान ने बाहर निकलकर उसे तंबी की थी वो जवाब दिए बिना सहज सहज कर चलती गाड़ी तक आई फिर सारा रास्ता वो ट्रे हाथों में उठाई रही थी हाथ दुखने लगे थे मगर उसने जरा भी बद एहतियाती नहीं की ये जिंजर ब्रेड हाउस उसे अपने वाले से ज्यादा प्यारा था गाड़ी घर के पोरेच में रुकी तो जहान जल्दी से बाहर निकला और उसकी तरफ का दरवाजा खोला यकीनन ये इनायत उस जिंजर ब्रेड हाउस के लिए थी बल्कि अपने पैसे जाया ना होने के लिए वो ट्रे उठाए बाहर निकली जहान ने पिछली सीट पे पड़ा उसका शॉपर उठा लिया चलिए मादाम आपके कपड़े ड्राइवर ले आएगा वो बस यूं ही से कहता रास्ता छोड़कर उसे आगे जाने का इशारा कर रहा था हया के लबों पे मुस्कुराहट उमड़ आई अभी वो चंद कदम ही चल पाई थी कि ध्यान की आवाज उसके कानों से टकराई ये गाड़ी किसकी है शायद कोई मेहमान आया है उस बात पे हया ने गर्दन मोड़ के देखा पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी के आगे खड़ी गाड़ी और पैरों के नीचे से जमीन सिरकने लगी थी उस सियाह अकॉर्ड को वो हजारों गाड़ियों में भी पहचान सकती थी प, पता नहीं उसकी आवाज लड़खड़ा गई ट्रे पे जमे उसके हाथ मजीद सख्त हुए जिहान कुछ कहे बिना शॉपिंग बैग पकड़े उसके आगे आगे अंदर गया वो जिहान के पीछे अंदर आई एक एक कदम भारी हो रहा था लाउंज के धाने पर सारा मंजर दिखाई दे दिया था उसके कदम चौखट से जरा पीछे जम गए वो तारीख गोशे में खड़ी थी अंदर वाले लोग उसकी तरफ मुतवजह नहीं थे वहां वलीद एक सोफे पे टांग पे टांग रखे बैठा था सामने अब्बा अम्मा ताया साइमा ताई रुहेल नताशा फुप्पो और दावर भाई सोनिया सब ही थे सोनिया तो चलो शादीशुदा थी सो की रिवायत के मुताबिक उसका पर्दा नहीं था मगर अचंभे की बात यह थी कि इरम भी वहीं कोने में खड़ी थी उसके हाथ में ट्रे थी जैसे शायद वो कुछ सर्व करने के बहाने अंदर आई और फिर वहीं खड़ी हो गई हो जिहान आगे आया एक नज़र उन सबको देखा और फिर एक मिनट कहकर शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया जैसे उन्हें रखना है और सीढ़ियां चढ़ता गया वो वहीं अकेली खड़ी रह गई ट्रे को पकड़े उसके हाथ पसीने में भीग गए थे वलीद ने जिहान को सीढ़ियां चढ़ते देखा तो गर्दन उस तरफ मोड़ दी हया को देखते हुए एक जहरीली मुस्कुराहट उसके मुंह पे उमड़ आई वो कुछ मसरूर सा वापस उन सब की तरफ मुड़ा जो अभी तक उलझी निगाहों से उसे देख रहे थे जी सुलेमान अंकल तो मैं कह रहा था कि हमें इस मामले पे आराम से बात करनी चाहिए और मिस हया सॉरी मिसेस हया तो ये जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ उसने बात करके फिर से गर्दन मोड़कर एक फातिहाना नजर हया पे डाली अब्बा ने उसकी निगाहों के ताकुब में हया को देखा और फिर उन्हीं उलझी निगाहों से वलीद को वलीद ये मेरा घर है यहाँ इस तरह के मामले डिस्कस करने का क्या मतलब है अब्बा को जैसे उसका आना और ये सब कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था रुहेल ताया अब्बा सब के माथे पे बल थे जैसे किसी को भी ये पसंद नहीं आ रहा बात घर की थी इसीलिए मैंने सोचा घर में कर ली जाए जो चीज मेरे पास है उसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि आप लोग इतनी आसानी से मेरे शेयर्स सील नहीं कर सकते वलीद ये कोई तरीका नहीं है दावर भाई नागवारी से कहते उठने लगे रुहेल भी भरमी से सब कुछ देख रहा था इरम उसी तरह कोने में खड़ी थी शायद उसे किसी ने जाने के लिए नहीं कहा था या शायद कहा हो तब भी वो वहीं खड़ी होगी वो غالबा सारा तमाशा देखना चाहती थी इस सारे में अगर कोई बड़े मजे से बैठी कोक के केन से घूट घूट बढ़ रही थी तो वो नताशा थी हर फिक्र से बेनियाज हर सिचुएशन को एंजॉय करती हुई दावर तुम इसे जरूर देखना चाहोगे आखिर इसका ताल्लुक तुम्हारी ही शादी के फंक्शन से तो है वो कहते हुए खड़ा हुआ और हाया की तरफ देखकर अपनी जेब से एक प्लास्टिक रैपर निकाला जिसमें रखी सीडी साफ नजर आ रही थी क्या मैं इसको चला दूं? उसने सीडी हया को दिखाते हुए पूछा सब लोग इस बात पर मुड़कर हया को देखने लगे वो जो साकित सी खड़ी बिना पलक झपके उसे देख रही थी उस बात पर बेख्तियार उसके कदम पीछे हटे कमर दीवार से जा लगी हाथ में पकड़ी ट्रे बहुत वजनी हो गई थी जो बात करनी है अब्बा से करो रुहेल बरहमी से बोला था उसकी बात को वलीद ने जैसे सुना ही नहीं उसे लम्हे जहान खाली सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया था जो बात करनी है मुझसे करो हाँ बोलो क्या मसला है वो जैसे अब फारिग होकर बहुत संजीदगी से कहता वलीद के सामने आकर खड़ा हुआ हया ने उम्मीद से जहान की तरफ देखा वो यकीनन समझ जाएगा कि ये वही वीडियो है वो अभी वलीद को कुछ दे मारेगा या सीढ़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगा उसे पूरी उम्मीद थी उसके बाद से वलीद की मुस्कुराहट गहरी हुई ये शो टाइम है और तुम तो इस शो को जरूर देखना चाहोगे बात के अख्ताम पे वलीद ने फिर हया को देखा उसका बार बार हया को देखना सबको उलझन और अजीब सी कैफियत में मुबतला कर रहा था क्या है इस सीढ़ी में जहान ने संजीदगी से उससे पूछा अलबत्ता आंखों में जरा सी उलझन थी वो नहीं समझा था अल्लाह अल्लाह वो नहीं समझा था उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जिहान नहीं समझा था वो कहना चाहती थी चिल्लाना चाहती थी जिहान उससे मत पूछो प्लीज जिहान उसे घर से निकाल दो उसे कुछ दे मारो मगर उसे यहां से भेज दो मगर सारे अल्फाज हलक में दम तोड़ गए आपके घर की चीज है तो आप जरूर देखना चाहेंगे और उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आप मुझे अपनी कंपनी में किस हैसियत से काम करने देंगे लाउंज में खामोशी थी सब सुन रहे थे बोल बस वही दोनों रहे थे हया का सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा दम घुट रहा था फिजा में ऑक्सीजन कम हो गई थी मगर इसमें है क्या वो रहा टीवी और वो उसके नीचे डीवीडी रखा है इसको खुद लगाकर देख लो बहुत इंजॉय करोगे उसने सीढ़ी जिहान की तरफ बढ़ाई हया के नथनों से ऑक्सीजन का कोई झोंका टकराया था सांस खुशगुमानी उम्मीद एक किरण सी नजर आई थी कि जिहान सीढ़ी हाथ में लेते ही तोड़ देगा और वलीद को दे मारेगा जिहान ने जरा तजब्जुब से सीढ़ी को देखा और फिर उसे थाम लिया मगर उसने उसे नहीं तोड़ा उसने सीढ़ी को कवर से निकाला उलट पलट कर कर देखा और फिर सर उठाकर वलीद की तरफ मुतवजह हुआ आर यू श्योर कि इसमें कुछ ऐसा नहीं जो किसी के तोहिन का बायस बने क्या मैं इसे वाकई सबके सामने चला दूं? इसमें जो है वो सब सच है कोई फिक्सिंग नहीं है चलाओ जरूर चलाओ ध्यान ने सीढ़ी पकड़े पकड़े ताया अब्बा को देखा वो उसी उलझी हुई निगाहों से उसे देख रहे थे किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये अचानक हो क्या रहा है इस तरह अचानक वलीद का आना फिर उन सब से कहना कि वो उनसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है और फिर ये सीडी वगैरह जिहान ने मुड़कर इरम को देखा क्या मैं इसे चला दूं? उसने इरम से इजाज़त मांगी थी वो उससे क्यों पूछ रहा था क्या उसे एहसास नहीं था कि ये सीढ़ी इरम ने ही तो वलीद को दी होगी और इसीलिए इरम ने बहुत ही बेनियाजी से शाने उचकाए जैसे कह रही हो मिली बला से अलबत्ता उसकी आंखों में मुस्कुराहट सी थी शो टाइम की मुस्कुराहट के अब आएगा मज़ा जिहान ने फिर वली को देखा जैसे खुद भी मुतजब्जब था कि उसे यह सीढ़ी चलानी चाहिए या नहीं जिहान ने एक सपाट सी निगाह उस पर डाली और फिर ओके कहते हुए मुड़ा उसके कदम दीवार में लगे टीवी की तरफ उठ रहे थे किचन की खुली खिड़की से हवा का झोंका आया और आधी खुली दीवार पर लटके वेंट चाइम की लड़ियां गोल गोल घूमने लगी स्टिक और कांच टकराए खामोशी में मध्यम सा नगमा बज उठा था मातम का नगमा सोख का नगमा जिहान ने एक कदम मजीद टीवी की तरफ बढ़ाया बाहर बादल जोर के गरजे बिजली चमकी और हया के हाथ से जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे गिर पड़ी हल्के से ठटकी आवाज के साथ ट्रे ओंधे मुंह जमीन बोस हुई कोई उसकी तरफ मुतवजह नहीं हुआ था वो सब उसी सीडी को देख रहे थे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे दिखाने के लिए वजीद इतना बेचैन हो रहा था जिहान आहिस्ता आहिस्ता चलता टीवी की तरफ जा रहा था हया का टूटा हुआ जिंजर ब्रेड हाउस उसके कदमों में गिरा पड़ा था लेकिन उसे परवाह नहीं थी वो बस सांस रोके लाउंज में बैठे नफूस को देख रही थी अब्बा रुहेल जिहान बाप भाई शोहर कोई उसके साथ ना था कोई उसे इस पर आए मर्द ब्लैक मेलर से बचा नहीं सकता था मगर क्या वाकई कोई नहीं था अल्लाह ताला उसने जोर से पुकारा था अल्लाह का नाम वो वाहिद नाम होता है जिसको बोलने के लिए होठ हिलाने की जरूरत नहीं होती उसने भी नकाब तले आपस में बंद होठों के पीछे जबान हिलाकर उसे पुकारा था अल्लाह ताला मैं बहुत अकेली हूँ मेरे पास इस वक्त कोई नहीं जिसे मैं पुकार सकूं जहान अब टीवी के पास पहुंच चुका था हया के दिल पे पड़ता बोझ अब बढ़ता जा रहा था सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं आप दें तो कोई छीन नहीं सकता जहान ने टीवी का बटन ऑन किया और फिर रिमोट से सीडी चलाया अब टीवी स्क्रीन नीली आ रही थी आप छीन ले तो कोई दे नहीं सकता जिहान ने झुककर बटन दबाते हुए डीवीडी की प्लेट बाहर निकाली दफतन रिमोट उसके हाथ से फिसल पड़ा मार्बल के फर्श पे रिमोट गिरा था चंद लम्हे मजीद गुजर गए मेरी मदद करें मुझे अकेला मत छोड़ें जिहान रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ काश रिमोट टूट जाता मगर वो नहीं टूटा था हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी जिहान ने खाली सांचे में सीढ़ी रखी और उसे वापस धकेला मुझे इन लोगों के सामने रसवा ना करें स्क्रीन पे मेन्यू लिखा आ रहा था जिहान ने जरा पीछे होकर रिमोट से प्ले का बटन दबाया मुझे रुसवा ना करना प्लीज हेल्प मी प्लीज हया ने आंखें बंद कर ली शायद सीढ़ी ना लगे और वो अंदर फंस जाए शायद मगर चंद ही लम्हों बाद उसे गाने की टोन सुनाई दी थी शीला की मौसीकी उसके कदमों तले से जमीन सिरकने लगी थी सर से आसमान हटने लगा उसे लगा वो अभी गिर जाएगी वो अभी मर जाएगी वीडियो लग चुकी थी सब देख रहे थे वो ख्वाब नहीं था वो हकीकत थी वो एक दफा फिर रुसवा होने जा रही थी सारी रजात सारी अतात सब बेकार गया था रुसवाई गुनाह वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे वो कबर तक उसके पीछे आएंगे उसने अपनी सुर्ख पड़ती बंद आंखें खोली लाउंज का मंजर जरा सा धुंधला रहा था उसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा जो बहुत शॉक्ड से स्क्रीन को देख रहे थे उसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत कर दिया था उसने रुहेल का चेहरा देखना चाहा जैसे समझ ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है उसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा गैज गजब गुस्सा पिशानी की तनी नसें सुर्ख पड़ता चेहरा उसने सायमा ताई और अम्मा के चेहरे को देखा हक्का बक्का गाना उसी तरह चल रहा था उसने नताशा के चेहरे को देखा वो बड़े सताईशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी थी कोक का केन अभी तक उसके हाथ में था उसकी निगाहें नताशा से होती हुई जिहान के चेहरे पे पड़ी जिहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी को नहीं देख रहा था वो सिर्फ चुपती हुई निगाहों से वलीद को देख रहा था और वलीद तब उसने देखा वलीद का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था इतना सफेद जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो उसी पर उसने इरम को देखा उसका चेहरा भी उतना ही सफेद ये क्या एकदम से हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा नकाब तले उसके होंठ जरा से खुले आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैली उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी गाना भी वही था म्यूजिक भी वही था सीढ़ी भी वही थी मगर मंजर नहीं ये शरीफों का मुजरा नहीं था नहीं ये उसकी वीडियो नहीं थी ये तो इरम और वलीद वो तस्वीर का एक स्लाइड शो था एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीर स्क्रीन पे उभरती और चली जाती इरम और वलीद की तस्वीर इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में किसी शॉपिंग एरिया किसी पार्क में सारी फोटोज सेल्फ फोटोज थी जैसे वलीद के साथ होकर इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से कहती हो और इस लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े थे हर दो तीन तस्वीर के बाद स्क्रीन शुदा ईमेल्स स्क्रीन पे उभरती उनमें से कुछ फिक्रे हाईलाइटेड थे वो तस्वीर इतनी देर तक स्क्रीन पे रहती कि वो सब उन हाईलाइटेड फिक्रों को पढ़ लेते फिर अगली तस्वीर आ जाती इरम और वलीद की जाती ईमेल्स ये ये क्या वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन टांगों पे अपने घर नहीं जाओगे वहीं खड़े रहो जिहान का वो उलझन भरा चेहरा वो तजब्जुब सब गायब हो गया था वो इतने सर्द और कटीले अंदाज में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए उसने शशदर सी निगाहों से जिहान को देखा ये शो टाइम है ना वलीद लगारी और तुमने कहा था इस शो को मैं बहुत इंजॉय करूंगा मैं तो कर रहा हूं तुम भी करो मगर शायद तुम कोई गलत सीधी उठा लाए हो ये ये गलत है ये सच नहीं है वरीद लगारी हकला गया कभी वो सोफों पर बैठे नफूस को देखता कभी ध्यान को हया को देखना तो उसे याद ही नहीं रहा था अभी तुमने खुद कहा था कि यह हकीकत है तुम्हारे कौन से बयान पे यकीन करूं मैं वो दृष्टि से बोला मगर इसी असना में दावर भाई गुस्से से उठे थे घटिया इंसान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्लीज ध्यान ने हाथ उठाकर उन्हें उसके करीब आने से रोका हाथ का इस्तेमाल मुझे भी आता है मगर यहाँ खवातीन बैठी हैं इसलिए इस आदमी से मैं खुद निपट लूंगा बाद में और अभी उसने अंगिष्ट शहादत उठाकर कहर आलूद निगाहों से वलीद को देखते तंबी की अभी तुम यहां से अपनी शक्ल गुम कर लो तुमसे मैं बाद में मिलूंगा क्योंकि ये सीढ़ी अब मेरे पास है और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा होने वाला ससुर या उसकी बेटी ये सब देखे सैनिटर अब्दुल वली की बेटी से रिश्ता हो रहा है ना तुम्हारा वलीद लड़खड़ा कर पीछे हटा ताया अब्बा रुहेल सब अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे बस नहीं चल रहा था उस आदमी को गोली मार दें आउट सुलेमान साहब जब्त से बजोर बोले थे वलीद उस उड़ी रंगत और बदहवास कदमों से पलटा सामने दीवार के साथ लगी हया खड़ी थी उसकी नकाब से झलकती सियाह आंखों में भी सख्ता तारी था वलीद उन आंखों में नहीं देख सकता था वो तेजी से बाहर निकला बाहर उसी तरह बारिश के कतरे गिर रहे थे टीवी स्क्रीन पे वो स्लाइड शो अभी तक चल रहा था इरम सफेद चेहरे के साथ वो देख रही थी तस्वीरें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी ये सब फोटो फिक्सिंग होगी पुप्पो रंजीदगी से बोली थी हालांकि तस्वीर बहुत क्लियर थी मगर ताया और दावर के सुर्ख चेहरे वो इरम को किसी तूफान से बचाना चाहती थी तेज बारिश थम चुकी थी हल्की हल्की बूंदा बांदी जारी थी खिड़कियों के शीशों पर गिरते टप टप की आवाज़ मुसलसल आ रही थी पुप्पो की बात पे साइमा ताई को तकलीफ नहीं ली ये सब झूठ है इल्जाम है मेरी बच्ची पे ये सब इरम और हया की तस्वीरें थी ये लड़का कहां से आ गया इनमें वो अपनी बात सुनवाने के लिए जोर से बोली थी और ये सारी तस्वीरें हया के पास थी उसने दी होगी इस लड़के को और नाम मेरी बेटी का लगा दिया घर चलो तुम लोग साया फरकान कहर बरसाती निगाह से उनको देखते हुए बोले थे मेरी बात सुने ये हया के पास थी तस्वीरें उसने इसीलिए वो लड़का बार बार हया का नाम ले रहा था मेरी बीवी का नाम मत ले मुमानी अब्बा सायमा ताई की बात पे नागवारी से एहतजाज करने ही लगे थे तो वो जैसे गुस्से से कहता उनके सामने आ खड़ा हुआ था ये तस्वीरें शायद आपको आपकी बेटी के लैपटॉप से भी मिल जाएं, मगर मेरी बीवी का नाम अगर किसी ने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वो इतनी सख्ती से उंगली उठाकर बोला था कि सायमा मुमानी आगे से कह ना सकी फातिमा और फुप्पो ने अफसोस से एक दूसरे को देखा जैसे समझ नहीं आ रही हो कि क्या करें घर आओ तुम लोग ताया अब्बा ने बहुत जब्त से सुर्ख पड़ती निगाहों के साथ बीवी को इशारा किया और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए दावर भाई फौरन बाप के पीछे लपके अब्बा ये सब मैंने नहीं ये हया ने इरम ने उनको आवाज देना चाही इरम जिहान ने हैरत और गुस्से से देखा तुम मेरी बीवी का नाम इस सब में कैसे ले सकती हो ताया जा चुके थे इरम ने बेबसी से जिहान को देखा तुम्हें क्या लगता है तुम लड़कियों को क्या लगता है हाँ तो मोबाइल से मैसेज मिटा दोगी कॉल रिकॉर्ड हजफ कर दोगी तो वो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं होता है रम हर एसएमएस रिकॉर्ड होता है हर कॉल रिकॉर्ड होती है एक दफा फिर लो मेरी बीवी का नाम और मैं तुम्हें अपनी एजेंसी से वलीद के फोन पे की गई हर कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकलवा कर दिखाऊंगा मेरे लिए ये बहुत आसान है इरम ने खुश्क लबों पर जबान फेरी और अपनी मां को देखा मगर वो पहले ही बाहर जा रही थी वो तेजी से उनकी तरफ लपकी चौखट में खड़ी हया और उसके कदमों में गिरे मलबे को उसने देखा भी नहीं लाउंज में फिर से खामोशी छा गई सब जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा थे सिवाय नताशा के वो बड़े मजे से हाथ झाड़ते हुए उठी केन साइड टेबल पर रखा और रुहेल को मुखातिब किया honestly Ruhail you have a very interesting family Ruhail ने हम्म, हम्म कहते हुए उसे घूरा फिर माजरत खाना अंदाज में बाकियों को देखा नताशा ध्यान के साइड से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ चली गई शो टाइम खत्म हो चुका था अलबत् जाने से कबल नताशा ने ध्यान की तरफ जो मुस्कुराहट उछाली थी कोने में खड़ी हया के जहन में वो अटक कर रह गई थी ये सब कैसे हुआ वो अभी तक दम बखुद थी मगर नताशा की मुस्कुराहट ओह डियर नताशा उसका और जहान का बातें करना फिर उसका इतने बड़े शॉपिंग बैग उठाकर सायमाताई की तरफ जाना और फिर ऊपर वापस जाना वो सायमाताई को शॉपिंग दिखाने नहीं इरम का लैपटॉप उड़ाने गई थी वरना उसे कब से ताई से इतनी मोहब्बत हो गई वरना जिहान को कैसे पता कि ये तस्वीर इरम के लैपटॉप में थी वो भी ऊपर कमरे में हया के कपड़े रखने नहीं वही सीढ़ी लेने गया था रिमोट गिराते हुए झुककर उसने सीढ़ी स्वाप की थी ओह जिहान वो शॉपिंग का माहिर था एक एक करके सब लाउंज से चले गए फुप्पो ने अलबत्ता जाते हुए अफसरदा निगाहों से जिहान को देखा था ये सब क्या था जिहान वो शायद कोई गलत सीटी उठा लिया था उसने शाने उचकाए जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं तुम्हारा हाथ है इसमें पता है मुझे वो झड़क कर कहती खफगी से बाहर निकल गई इस सारे में वो पहली बार हया की तरफ मुतवजह हुआ वो उसी तरह दीवार से लगी खड़ी थी जिहान को अपनी तरफ देखते पाकर उसने नकाब खींचकर उतारा उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ रहा था और तब ही जहान ने देखा अल्लाह अल्लाह ये तुमने क्या किया ये तुमने कैसे किया जहान एकदम आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरने लगे वो परेशानी से जिंजर ब्रेड के मलबे को देखता उस तक आया मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने ये क्यों तोड़ा जहान हया ने लबों पे हाथ रखकर खुद को रोने से रोका मगर आंसू बहते जा रहे थे मैं बहुत डर गई थी तुम जानते थे ना कि वो वीडियो वलीद के पास है मलबे से निगाह हटाकर जहान ने गहरी सांस लेते हुए हया को देखा डेरिन क्यों में तुमने दो दफा कहा था कि अगर कोई तुम्हें गाड़ी तले कुचल दे दो दफा कही बात की कोई वजह होती है मैंने यहां आते ही मालूम कर लिया था सब तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं उससे बोला नहीं जा रहा था हया आपके अपने और किस लिए होते हैं और मुझे कब तुमने परेशान नहीं किया एक दफ़ा मजीद करने में हर्ज ही क्या था अगली दफ़ा मुझ पर भरोसा करके देखना मगर इरम उसकी तो बहुत ध्यान के जबड़े की रगें तन गईं उसका जिक्र मत करो जब इंसान कुछ गलत करता है तो उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ता है आज किसी एक ने तो रसवा होना था मगर मैंने एक लड़की से वादा किया था कि जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह रुसवा नहीं करता मुझे अपना वादा निभाना था फिर उसने टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस को देखा कब तुम जज्बात में आकर चीजें फेंकना छोड़ोगी लड़की साथ ही वो नूर बानो को आवाज देने लगा था ताकि वो जगह साफ की जा सके I love you Jihan I really love you वो रुंधी हुई आवाज और फरते मुसरत रोने और मुस्कुराने के दरमियान बोली थी जिहान ने चौंक कर उसे देखा और फिर दाएं बाएं मेरी बचपन की सहेली ठीक कहती है इस घर में सब बहुत इंटरेस्टिंग है वो झिरझिरी लेकर आगे बढ़ गया नूर बानो उसी तरफ आ रही थी हया यूं ही अबाया में मलबूस लाउंज के सोफे के हथ पे बैठी और मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया हथेली से आंसू पोंछते उसने फोन कान से लगाया डॉक्टर इब्राहिम मैंने वो पहेली हल कर ली वो मुड़कर चौखट पे पंजों के बल झुके बैठे जिहान को देखते हुए बोली जो नूर बानो के साथ जिंजर ब्रेड के टुकड़े उठा रहा था अच्छा क्या मिला आपको फिर दूसरी जानब जैसे वो मुस्कुराए थे आयत हिजाब सूरह एहजाब में नाजिल हुई है मैं बताती हूँ आपको हिजाब और जंग एहजाब की मुमासलत वो रुंधी हुई आवाज़ में कह रही थी मैं बताती हूँ आपको कि जंग एहजाब में क्या किया है जंग एहजाब में ग्रोह भी हैं बनो कुरैजा भी खंदक भी है सर्दी और भूख की तंगी भी तीन तरफ खंदक तो एक तरफ घने दरख्तों का साया और मजबूत चट्टान भी जो खामोशी से आपको सपोर्ट करते हैं उसने ध्यान की पुष्ट को देखते हुए कहा वो अफसोस से नफी में सर हिलाते हुए टुकड़े प्लेट में डाल रहा था उसकी जीन्स की जेब में एक सीढ़ी झलक रही थी लेकिन अगर जंग एहजाब में कुछ नहीं है तो वो जंग नहीं है ये वो जंग है जिसमें जंग होती ही नहीं है इक्का दुक्का इनफरादी लड़ाइयों को छोड़कर असल जंग हथियारों से लड़ी जाने वाली जंग से कबल ही एक रात तूफान आता है और दुश्मनों के अपने खेमों की हवा उखड़ जाती है उनकी हांडियां उन्हीं पे उलट जाती हैं और वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं मुझे मेरी एक छोटी दोस्त ने यही बात कही थी कि ये जंग जीता कौन था तब नहीं समझी मैं अब समझी हूं जंग नहीं वो लड़ाई की बात कर रही थी लड़ाई जो इस जंग में होती भी नहीं है आपको सब्र और इंतजार करना होता है किसी को एक दिन किसी को एक माह और किसी को कई साल और फिर एक दिन आप बगैर कुछ खोए बगैर किसी महाज पे लड़े बगैर किसी नुकसान के अचानक से वो जंग जीत जाते हैं यही बात थी ना सर मेरे जहीन बच्चे मुझे आप पे फख्र है वो बहुत खुश हुए थे हया ने डुबडुबाई आंखों से उस गरीब आदमी को देखा जो अभी तक अपने पैसे जाया होने पे अफसोस कर रहा था चीजें वक्ती होती थी टूट जाती हैं बिखर जाती हैं उनका क्या अफसोस करना अब उन दोनों को जिंजर ब्रेड के घरों को भूलकर रिश्तों और एतमाद से बना घर कायम करना था सुबह करीब थी उनकी सुबह वो पॉलर के ड्रेसिंग मिरर के सामने कुर्सी पर बैठी थी और ब्यूटिशियन लड़की महारत से उसका आई शेडो लगा रही थी उसने अपना ग्रे और सिल्वर फ्रॉक पहन रखा था बाल वगैरह अभी बनाने थे ऊंचा जूड़ा बनाएंगी क्या ब्यूटिशियन ने आईशेडो को आखिरी टच देते हुए पूछा था हया ने आईने में चेहरा दाएं बाएं करके आंखें देखी अच्छी लग रही थी हम्म फ्रेंच नॉट बना दो ऊंचे जुड़े में तो नमाज नहीं होगी और दो तीन नमाजें तो फंक्शन के दौरान आ जाएंगी आज ना पढ़े तो खैर है लड़की उकताई थी अपनी खुशी में अल्लाह को नाराज कर दूं? हम्म उसने नफी में सर हिलाया अच्छा नेल पॉलिश लगानी है या नकली नेल्स कुछ भी नहीं बार बार वजू के लिए उतारूंगी कैसे उसने सादगी से उल्टा सवाल किया ओहो अच्छा नकली पलके तो लगा दू ना अल्लाह ताला को बुरा लगेगा आपने आईब्रोज भी नहीं बनाई थोड़ा सा नीच कर दू अल्लाह ताला को और भी बुरा लगेगा लड़की के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया वो घूम कर उसके सामने आई आप कहीं अलहुदा की तो नहीं है हया हंस दी नहीं मैं बस एक मुसलमान लड़की हूँ और ये सोच रही हूँ कि जब मैं तुम्हें अपना दुपट्टा सेट करने को कहूंगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी वो जैसे सोचकर ही महफूज हुई लड़की ने अचंभे से उसे देखा क्यों पहले मेकओवर मुकम्मल करो फिर बताती हूँ मजे से कहती उसने दोबारा सर कुर्सी के पुष्ट पे टिका दिया ब्यूटिशियन लड़की जज्बत सी होकर आई शेडो किट उठाए फिर से उसके सर पे आ खड़ी हुई और जब हया ने उसे दुपट्टा अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने का कहा तो उसका मुंह खुल गया घूंघट कौन निकालता है घूंघट आप क्या बात कर रही हैं मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत नीचे तक निकालो बस थोड़ी तक आए नीचे वैसे ही बंद गला है उसने आईने में खुद को देखते हुए लापरवाही से कहा था मगर आपका चेहरा तो नजर ही नहीं आएगा और लड़की परेशान हो गई थी तुम निकाल रही हो या मैं खुद निकाल लूं और हाँ, ब्यूटिशियन के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा ना था उसे कोई बैद नहीं थी वो जल्दी से दुपट्टा सेट करने लगी उसने अब्बा से बहुत कहा कि मिक्स गैदरिंग ना रखें फोटोग्राफर्स ना हो मगर अब्बा और अम्मा ने एक ना सुनी हया मैं तुम्हारे पर्दे का फिर कोई इशू नहीं सुनना चाहती अम्मा तो बाकायदा बेजार हो गई थी हया जानती थी कि उसके सामने वो कभी एतराफ़ नहीं करेंगी कि वो उसके पर्दे से दिल से राजी थी मगर क्या फ़र्क पड़ता था उसने अपनी क्लास फेलो से पूछा हिजाबी लड़कियां दुल्हन बनते हुए क्या करती हैं कि कोई नाराज भी ना हो और वो हिजाब भी कैरी कर ले जितने ऑप्शन नजर आए उनमें सबसे बेहतरीन यही था घूंघट और फिर नीचे से दुपट्टा इतना फैला कर लिया हो कि पोशी का फर्ज अदा करे अब कोई उसकी तस्वीरें खींचे या नहीं उसे परवाह नहीं थी मैरिज हॉल में जब उसे ब्राइडल रूम से लाकर स्टेज पे बिठाया गया तो सना उसकी एक तरफ आ बैठी आज के लिए सना उसकी असिस्टेंट थी अपनी तरफ से तस्वीर खींचने वालों को वो मुसलसल मना कर रही थी हया आपा पर्दा करती हैं प्लीज फोटोज मत खींचें या अगर कोई उसके घूंघट पे कुछ बोलता तो वो जवाब भी दे रही थी आपा क्लासिकल दुल्हन बनी है और वो घूंघट नहीं उठाएंगी कोई चाची मामी खाला साथ आकर बैठती फिर जरा सा घूंघट उठाकर चेहरा देखती सलामी देती तारीफ करती या जो भी सब ऐसा था जैसे अमूमन मेहंदी की दुल्हन का होता है उसका ग्रे फ्रॉक पैरों तक आता था घेरे पे काफी काम था घूंघट थोड़ी तक गिरता नीचे दुपट्टा यू की शक्ल में फैलाकर सामने डला था आस्तीन पूरे थे और वो सर झुकाकर नहीं बैठी थी वो गर्दन उठाकर पूरे एतमाद के साथ बैठी थी हर पास आकर बैठने वाली आंटी से बड़े आराम से बातें कर रही थी लोग बुरा तब मानते हैं जब दुल्हन अकड़ कर बैठे अगर वो खुश मिजाजी से बात कर रही हो पूरे एतमाद के साथ तो लोग भी नर्म पड़ जाते हैं अलबत्ता कहने वाले तो कह रहे थे ये क्या किया मेकअप तो छुप गया खराब हो गया नाटक ड्रामे मगर वो अब उस मकाम पे थी जहाँ ये सब बातें सानवी महसूस होती थी मुश्किलें बहुत पढ़ कर भी आसान हो जाती हैं जहान उसके साथ आकर बैठा तो बहुत धीरे से बोला साबित हुआ कि तुम कुछ चीजों में वाकई बहुत स्मार्ट हो बस यही एक फिक्र कहा उसने फिर वो जल्द ही उठ के चला गया उसे यूं मरकज निगाह बनकर बैठना कबूल नहीं था बदतमीज ना हो तो वो फिर खुद भी ज्यादा देर स्टेज पे नहीं बैठी और वापस ब्राइडल रूम में आ गई ये नताशा का दिन था अब नताशा को पूरी तवज्जो मिलने चाहिए थी खैर वो पूरी तवज्जो ले भी रही थी साड़ी की पुष्ट पे जबरदस्ती उसने पल्लू डाला हुआ था मगर वो रुहेल का बाजू थामे मेहमानों के दरमियान हंसती बोलती घूम रही थी और फातिमा को हॉल उठ रहे थे जिहान भाई कह रहे हैं वो इधर आ जाए सना ने उसको आवाज दी वो जो ब्राइडल रूम में बैठी घूंघट पीछे गिराए लिपस्टिक ठीक कर रही थी चौंक कर पलटी क्या वो आ रहा था उससे मिलने उसका दिल जोर से धड़का हाँ बुला लो वो और सना अकेले ही तो थे अच्छा है सना बाहर चली जाएगी और वो दोनों कम अज कम बात तो कर सकेंगे दो दिन से तो वो नजर ही नहीं आया था जरा सी दस्तक के बाद दरवाजा खोल कर जिहान अंदर दाखिल हुआ स्याह डिनर सूट बाल पीछे किए बिल्कुल जैसे वो मेट्रो में लगा था पहली बार अब भी हैंडसम लग रहा था बल्कि नहीं हैंडसम इडियट लग रहा था क्योंकि वो जो मुंतजर सी खड़ी थी लबों पे जरा सी मुस्कुराहट लिए उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जहान के साथ वो सोबर और सादा लंबी सी सानिया भी थी हया माय वाइफ और हया ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कुलीग भी है सानिया बहुत तहजीब और शाइस्तगी से वो दोनों का तारुफ करा रहा था बहुत खुशी हुई सानिया उसी सोबर सी मुस्कुराहट के साथ आगे आई और मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाया हया ने बामुरवत मुस्कुराते हुए हाथ थामा और मिलाकर छोड़ दिया फिर एक शाकी नजर जिहान पे डाली वो बस इसलिए उसके पास आया था बदतमीज बस तुम्हें मिलवाना चाह रहा था सानिया से उनके हस्बैंड दोस्त हैं मेरे जी उनसे तो बहुत दफा मिल चुकी हूं वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली थी जिहान ने बेसाख्ता माथे को छुआ अच्छा हमाद ने नहीं जिक्र किया सानिया ने जहान को देखा वो जो उफ के अंदाज में माथे को छू रहा था फौरन से पिशानी मसल कर हाथ नीचे ले गया हाँ वो हम डिनर कर रहे थे तो वो मिल गया था खैर हम चलते हैं सी यू वो हया को घूर कर सानिया को रास्ता देते हुए सामने से हटा वो नाकदाना निगाहों से उन्हें जाते देखते रही तुम्हारे पास साबिर का नंबर है मैं उसे कॉल करना चाह रहा था तो हाँ ठहरो तुम्हें मैं सेंड करती हूँ वो दोनों अपने अपने सेल फोन सामने किए बातें करते बाहर निकल गए हम्म। वो पैर पटक कर वापस कुर्सी पे बैठ गई इस आदमी के साथ जिंदगी कभी भी फैंटेसी नहीं होगी पहले से वो जानती थी मगर अब इस बात पे यकीन भी आ रहा था सब कुछ बहुत मुश्किल था और मुश्किल होगा भी मगर खैर वो साथ तो थे ना आहिस्ता आहिस्ता वो इस सब की आदि हो जाएगी उसने खुद को तसल्ली दी और फिर दरवाजे की तरफ देखा जरा सी झरी खुली थी वहां से मैरिज हॉल के रोशनियां लोगों का रश हंसते बोलते मेहमान रंग खुशबू सब नजर आ रहा था उसके तने आसाब ढीले पड़ गए लब आप ही आप मुस्कुराने लगे उसने कलाई घुमाकर देखी बाहरी का नेकलेस ब्रेसलेट की सूरत उसमें पहना था और उसके साइड पे खाली कुंडे में अब एक मोती झूल रहा था स्याह मोती वो सफेद मोती नहीं बन सकी तो क्या हुआ स्याह मोती बनने में भी कोई हर्ज नहीं था कि फिर मोती तो वो मोती होता है और मोती तो वो होता है जिसकी कालिक भी चमकती है सुबह का दूधियापन इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर छाया हुआ था गुजश्ता रात की बारिश के बायस सुरमई सड़कें अभी तक गीली थीं। उसने किचन की खिड़की का पर्दा हटाया जाली से रोशनी और हवा अंदर झांकने लगी ताजगी का एहसास तभी दीवार में नस्ब ओवन खाना पकने की घंटी बजाने लगा वो आगे आई और ओवन का दरवाजा खोला फिर दास्ताने वाले हाथ से ट्रे बाहर निकाली पिघले हुए पनीर से सजा गरम गरम पिज्जा तैयार था उसने चेहरा जरा झुकाकर सांस अंदर उतारी खस्ता इश्तहा अंगेज खुशबू जहान को पसंद आएगा तारीफ नहीं करेगा अल्बत्ता थोड़ा खाएगा और उस पर भी कई दिन एक्सरसाइज के दौरानिया बढ़ाकर उन कैलोरीज को बर्न करने की कोशिश करता रहेगा अपने फिटनेस और सेहत के बारे में वो आज भी उतना ही कॉन्शियस था जितना चार साल कबल उनकी शादी के वक्त था उसने ट्रे अंदर धकेली और ओवन का ढक्कन बंद कर दिया अब जहान ऑफिस से आ जाएगा तभी वो उसे निकालेगी साथ ही उसने पलट कर घड़ी देखी अभी उसके आने में काफी वक्त था आज वैसे ही हया के सारे काम जल्दी खत्म हो गए थे अब क्या करे सबीन फुप्पो की किसी पुरानी दोस्त के बेटे की शादी थी सो वो कराची गई हुई थी वैसे यहाँ उनके अपार्टमेंट से अब्बा और ताया के घर ज्यादा दूर भी नहीं थे सो पहले उसने अम्मा की तरफ जाने का सोचा फिर इरादा तर्क करके अपने कमरे में आ गई जिहान और उसका बेडरूम बहुत नफासत मगर सादगी से सजा था वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थे मगर जिहान वो खराब बेतरतीब चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करता उसके साथ रहकर वो भी बहुत कुछ सीख गई थी खदीजा का कमरा गो के साथ वाला ही था मगर वो अभी इतनी छोटी थी बस तीन साल की कि ये कमरा उसका भी था उस वक्त भी वो कारपेट पे बैठी ब्लॉक्स को तोड़कर फिर से जोड़ने में लगी थी टूटे ब्लॉक्स एक तरफ थे जुड़े हुए एक तरफ बेतरतीब बेतरतीबी में भी तरतीब थी बाप की तरह वो भी क्लटर नहीं फैलाती थी खतीजा गुल क्या बना रही है वो अलमारी की तरफ बढ़ते हुए उसे मुखातिब करके बोली थी पट खोलकर उसने लैपटॉप का बैग निकाला और पलट कर अपनी बेटी को देखा जो उसके सवाल पे सर उठाकर उसे देखने लगी थी वो स्लीवलेस सुर्ख फ्रॉक में मलबूस थी मगर नीचे से उसने कोहनी तक आती पिंक शर्ट पहन रखी थी जुराबे भी पिंक नरम गहरे भूरे बाल पोनी में बंधे थे जिहान उसके बाल कटवाने नहीं देता था उसे लंबे बाल पसंद थे मगर सिर्फ खतीजा के खतीजा की माँ के बालों के बारे में वो राय नहीं दिया करता था गोरी गुलाबी रंगत उठी हुई नाक और जिहान जैसी आंखें वो जिहान की ही बेटी थी और जिहान को लोगों का खतीजा को उससे मिलाना बहुत पसंद था उसने हया से सिर्फ अच्छा कद लिया था मगर मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूँ उसका कद भी मुझ पे गया है वो शान ने उचका कर बेनियाजी से कहता था नथिंग खदीजा गुल ने जरा से शाने उचकाकर नफी में सर हिलाया और वापस काम में मगन हो गई हया ने जब उसका नाम खतीजा गुल रखा था तो जिहान ने एतराज नहीं किया था तुम अपनी पसंद का नाम रख लो मैं तो जो नाम भी बताऊंगा आगे से कहोगी अब इस नाम की अपनी पुरानी दोस्त का हुलिया भी बताओ जिसकी याद में ये रखना चाहते हो वैसे इतना गलत भी नहीं था वो सो उसने अपने बेटी का नाम खतीजा गुल रखा था मेरी तीन बेहतरीन दोस्तों की याद में खदीजा एक प्री मिच्योर बच्ची थी मगर सदा शुक्र के वो हमेशा सेहतमंद रही थी सो उनके लिए वो वाकई खतीजा गुल थी यानी वक्त से पहले पैदा हो जाने वाला गुलाब अपने गुलाब को मुस्कुराकर देखते हुए वो अलमारी का पट बंद करने लगी फिर यका यक ठहर गई जिस खाने से लैपटॉप बैग निकाला था उसके पीछे लकड़ी की दीवार का रंग बाकी अलमारी से जरा हल्का लग रहा था उसने अचंभे से उसे देखते हुए बैग नीचे रखा और हाथ बढ़ाकर पीछे लकड़ी को छुआ कार्डबोर्ड था वो उफ उसने दबे दबे गुस्से से कार्डबोर्ड के टुकड़े को दाएं बाएं करने की कोशिश की और जरा सी मेहनत से वो एक तरफ स्लाइड कर गया पीछे एक लॉकर था चंद लम्हे वो खबगी से उस बंद तिजोरी को देखती रही जिसमें पता नहीं क्या था और फिर कार्डबोर्ड की स्लाइड वापस जगह पे करके अलमारी बंद कर दी इस घर में पिछले चार सालों में कोई चार सौ खुफिया खाने तो वो ढूंढ चुकी थी पता नहीं अब कितना तलाशना बाकी थे जिहान से पूछना बेकार था वो बहुत हैरान होकर आगे से कहता अच्छा वेरी स्ट्रेंज पता नहीं मालिक मकान ने इतने लॉकर्स क्यों रखे हैं कभी बात करूंगा उनसे हाँ जैसे वो तो अपने शोहर को जानती ही नहीं थी ना खदीजा उसी महवियत के साथ ब्लॉक्स ऊपर नीचे जोड़ रही थी वो लैपटॉप खोले बेड पे आ बैठी और ईमेल्स चेक करने लगी साथ साथ वो खतीजा पे गाहे बगाहे नजर भी डाल लेती थी यही फ्रॉक पिंक शर्ट के साथ पहनाकर पिछले ही हफ्ते वो अम्मा की तरफ गई तो अम्मा हसबी आदत खफा होने लगी थी इतनी सी बच्ची पे तो ये पर्दा नहीं लगता ना तुम स्लीवलेस पहना दोगी तो क्या हो जाएगा हया ऑफकोर्स अम्मा उस पर पर्दा लागू नहीं होता मगर मैं इसे कोई जबरदस्ती का स्कार्फ तो नहीं उड़ा रही ना सिर्फ आस्तीन पूरे पहनाती हूँ अम्मा मैं नहीं चाहती कि इसकी हया मर जाए और वो इन चीजों की आदि हो जाए जो और उससे आगे अम्मा नहीं सुना करती थी वो आज भी हया के पर्दे की सबसे बड़ी मुखालिफ थी लेकिन वो कहां परवाह करती थी हां किसी का दिल चीर कर तो हमने नहीं देखा होता मगर वक्त और तजुर्बा ये अंदाजा करना तो सिखा देता है कि कौन दिल से कुछ कह रहा है और कौन सिर्फ जबान से लैपटॉप की चमकती स्क्रीन उसके चेहरे को भी चमका रही थी वो बहुत तवज्जो से अपनी ईमेल देख रही थी लंबे बाल आधे केचर में बंधे आधे पीछे खुले कमर पे पड़े थे चेहरा वैसा ही था मलाई जैसा और उसे लगता था वो इन चार सालों में पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है मगर खूबसूरत की बजाय तीन चार और अल्फाज हैं मेरी लुगत में मगर मैं कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा डाइनिंग टेबल पे ही एक रात उसके पूछने पे खाना खाते हुए जिहान ने बेनियाजी से कहा था वो सुलग कर रह गई अगर तुम्हारी ये लुगत किताबी शक्ल में दस्तियाब होती तो मैं उसे वाकई तुम्हें दे मारती वो बहुत खफगी से बोली थी मगर उस बात पे उसके साथ कुर्सी पे बैठी खतीजा ने आईब्रो तन कर नाराजगी से बोला नो हया वो उसके आइडियल बाप को कुछ दे मारने की बात कर रही थी वो कैसे बर्दाश्त करती और बस उसकी ये आदत खुद ब खुद दम तोड़ गई एक क्लिक के बाद अगला सफा खुला तो वो ठहर सी गई आंखों में पहले हैरत उभरी और फिर अचंबा वो मिस्र की एक यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस था जो उसकी दरख्वास्त पे उसे भेजा गया था मगर ये दरख्वास्त तो उसने दी ही नहीं थी क्या जहान ने उसकी तरफ से अप्लाई किया था वो उलझन भरी निगाहों से उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने लगी वो अक्सर कहती थी कि अब वो एल एल एम करेगी जिहान ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था कि अपनी मर्जी है जो करो तो क्या उसने पता नहीं मेल्स चेक करके उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी जिहान के आने में अभी कुछ वक्त था रिस्ट वॉच के साथ उसकी कलाई में वो ब्रेसलेट भी बंधा था और उसमें पिरोया स्याह मोती जो आज भी चमकदार था सच्चा मोती बस करो खदीजा आप कुछ खा लो वो लैपटॉप बंद करके उठी और बेटी के सामने से ब्लॉक समेटने लगी खतीजा खाने के मामले में जरा चोर थी बाज दफा जबरदस्ती करनी पड़ती थी ऐसे ही एक दफा खतीजा बहुत बीमार थी और हया उसे कुछ खिलाना चाह रही थी मगर खतीजा ने हाथ मार कर प्याला गिरा दिया तो उसने बहुत गुस्से से कहा था अल्लाह अल्लाह बात क्यों नहीं मानती हो मैं किधर जाऊं और खदीजा ने सुर्ख चेहरे और डुबडुबाई आंखों के साथ गुस्से से कहा था जहन्नुम में जाओ और वो बिल्कुल शल रह गई बस वो आखिरी दिन था फिर उसने अपना तकिया कलाम तर्क कर दिया था बस अब और नहीं बुरी आदतें हमें खुद बदलनी पड़ती हैं अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही सही खदीजा को किचन काउंटर पे बिठाकर उसने फ्रिज का दरवाजा खोला ताकि अंदर से खीर निकाले मगर दरवाजे के अंदरूनी तरफ अंडों के खाने में एक पोस्ट किट नोट चिपका था उसने नोट उतारा और सीधे होते हुए पढ़ा लंच टाइम पे कबूतरों को याद करने में कोई हर्ज तो नहीं है लंच टाइम उसने बेसाख्ता घड़ी देखी लंच टाइम तो होने वाला था अल्लाह अल्लाह ये आदमी बिना चलो खदीजा बाबा के पास जाना है उसने जल्दी से बच्ची को काउंटर टॉप से उतारा बाबा सुनकर उसके चेहरे पे सारे जहां की खुशी उमड़ आई वो फौरन अंदर की तरफ दौड़ी जब तक हया दरवाजे खिड़कियां बंद करके आई वो हया का बड़ा सा पर्स कंधे पे लटकाए उसका वाया घसीटती फर्श पे झाड़ू देती ला रही थी थैंक्स अपने जूते पहनो आप उसने जल्दी से अबाया और पर्स उससे ले लिया महासन के कबूतर का जिक्र पहली दफा जहान ने एक अतालवी रेस्टोरेंट में किया था उसके बाद से उस रेस्टोरेंट को वो कबूतरों के कोड नेम के साथ याद करते थे लेकिन क्या था कि अगर वो सुबह नाश्ते पे कह जाता कि लंच बाहर करेंगे मगर नहीं वो इंसानों की जबान में बात ही कब करता था सुबह से इतनी दफा फ्रिज खोला पता नहीं क्यों नजर नहीं पड़ी उफ आधे घंटे बाद वो अपने हरीर के सियाह अबाया में मलबूस खदीजा की उंगली थामे रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ रही थी ऊपर आकर देखा कोने वाला मेज खाली था वो वहीं कहीं होगा मगर जब तक वो बैठ नहीं जाएगी वो नहीं आएगा वैसे वो इस तरह बाहर कम ही बुलाता था यकीनन अब कोई ऐसी बात थी जो वो घर में नहीं करना चाहता था खदीजा को मखसूस कुर्सी पे बिठाकर वो जैसे ही बैठी उसे वो सामने से आता दिखाई दिया ग्रे कोट बाजू पे डाले कफ मोड़े टाई ढीली संजीदा चेहरा और हमेशा की तरह हैंडसम उसके सामने कुर्सी खेच कर बैठते ही वो बोला था मरहबा क्या हाल है फिर मोबाइल वॉलेट मेज पे रखते हुए उसने झुककर खतीजा के दोनों गाल बारी बारी चूमे बाबा यू नो वॉट खदीजा चहक कर जल्दी जल्दी उसे कुछ बताने लगी थी और वो तवज्जो से मुस्कुराते हुए सुन रहा था आधी तो यकीनन हया की शिकायत थी नहीं वो मामा कहने का तकल्लुफ नहीं किया करती थी वो वही कहती थी जो उसका बाप कहता था जब ऑर्डर सर्व हो चुका तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला और सब ठीक है तमहीद को कट करो ध्यान और आप बता भी चुको कि क्या बात है नहीं इतना कुछ खास नहीं है बस ऐसे ही वो छुरी कांटे की मदद से स्टेक का टुकड़ा तोड़ते हुए लापरवाही से बोला था बहुत खास बात है और घर पे नहीं हो सकती थी ये फिक्र उसने कहा नहीं था मगर हया तवज्जो से सर हिलाती उसको सुनते हुए खुद ही जहन में उसके अल्फाज डी कोट कर रही थी असल में मैं कुछ आगे का सोच रहा था मुझे आगे का असाइनमेंट मिल गया है और ऊपर से हुक्म आया है कि कुछ दिन के लिए थोड़ा सा घूमने फिरने बाहर चला जाऊं यानी एक दो साल तो कहीं नहीं गए हम्म हया ने समझकर सर हिलाकर उसे मजीद बोलने दिया ज्यादा दूर नहीं बस करीब ही मेल चेक की तुमने आज हया ने बस हाँ में गर्दन हिलाई बोली कुछ नहीं करीब यानी कि मिस्र वहीं से मेल आई है ना तुम्हें तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो संजीदगी से उसको देखते हुए पूछ रहा था तुम रह लोगी इतना अरसा हया ने शाने जरा से उचकाए जैसे तुम्हारी मर्जी दिल अलबत्ता बहुत उदास हो गया था तो बिल आखिर वो लम्हा आन पहुंचा था जब उसे एक फौजी की बीवी का किरदार अदा करना होगा घर रहकर बरसों इंतजार करने वाली बीवी का खतीजा बड़ी हो जाएगी और फिर पता नहीं वो कब अपने बाप को दोबारा देख पाएगी जिंदगी भी बहुत गैर यकीनी चीज थी खतीजा तो मेरे बगैर रह लेगी मम्मी के साथ उसकी बहुत बनती है वो भी हया की तरह शायद उसकी सोच को डिकोड करके बोला था मगर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा जानता हूं तुम मुझे मिस करोगी वो जरा सा मुस्कराया मैं तुम्हें मिस करूंगा मगर क्यामत तक इस बात का इकरार नहीं करूंगा अच्छा तो फिर फिर ये कि उसने प्लेट परे करते हुए हया को देखा मैं एक ऐसा कवर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे शायद किसी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के लिए पढ़ाना पड़े तुम्हें भी आगे पढ़ने का शौक है तो क्यों ना हम यूं करें कि खदीजा को मम्मी के पास छोड़ दें और तुम मेरी स्टूडेंट बनकर मेरी क्लास में इनरोल हो जाओ यहां पर आकर उसने मुस्कुराहट दबाई हाँ लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी करूंगा कि तुम मेरी सबसे ज्यादा डांट खाने वाली स्टूडेंट होगी अच्छा और तुम्हें लगता है कि मान जाऊंगी मैं वो जरा तवक्कुफ के बाद बोली थी तुर्की के इन पांच माह की तरह एक दफा फिर तुम ड्राइविंग सीट में होगे और हर चीज कंट्रोल करोगे हाँ तो तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा आइडिया है मगर थोड़ी सी तब्दीली की गुंजाइश है इस सारे मामले में वो पहली दफा मुस्कुराई थी हथेली थोड़ी तले रखे वो बहुत मुतमिन सी उसे देखते हुए कह रही थी हम अपनी जगह स्वाप कर लेते हैं मतलब वो उलझा मतलब कि मैं टीचर होंगी और तुम मेरे स्टूडेंट होगे और हाँ मैं इस बात की यकीन दहानी करूंगी कि तुम मेरे सबसे ज्यादा डांट खाने वाले स्टूडेंट होंगे और तुम्हें लगता है कि मान जाऊंगा मैं हाँ क्योंकि इस दफा मैं ड्राइविंग सीट में होना चाहती हूँ और तुम्हारे पास फैसला करने के लिए दस सेकंड्स हैं उसने साथ ही घड़ी देखी हया वो झिंझलाया था खदीजा ने सर उठाकर उसे देखा और फिर हया को और फिर से ध्यान की प्लेट से स्टेक के टुकड़े उठाने लगी वो हमेशा उसकी प्लेट से खाती थी डील हया ने आईब्रो उठाकर पूछा और दोबारा घड़ी देखी वो जरा नाखुश सा लग रहा था चंद लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर शायद उसे कोई अपना फायदा नजर आया था तभी बोला ओके डील मगर उसने नेपकिन से होठ थपथपाते हुए कहा यह याद रखना कि तुम हमेशा मुझसे दो कदम पीछे रहोगी देखते हैं मगर तुम ये याद रखना कि कुछ दिन बाद तुम मुझे मैडम कहोगे जवाब में वो धीमी आवाज में खफगी से कुछ बड़बड़ाकर वॉलेट खोलने लगा हया ने आसूदा मुस्कुराहट के साथ उसे देखा खदीजा अभी तक उसकी प्लेट से खा रही थी मिस्र काहिरा यूनिवर्सिटी कौन जाने कि इस नए सफर पे उसे उसकी बिछड़ी हुई दोस्तें वापस मिल जाएं? कौन जाने कि आयशा और बहारें भी मिस्र में रहती हूँ कौन जाने कि आयशा अब भी वैसी ही सादा और मजहबी सी हो जबकि बहारें एक खूबसूरत टीनएज लड़की में बदल गई हो जहान को जॉब की वजह से उनसे رابطہ करने की इजाजत ना थी मगर हया ने अपने सामने मौजूद दोनों नफूस को देखते हुए जेरेलब मुस्कुराते हुए सोचा मगर कौन जाने कि हया ने उनसे रबता कभी तरखी ना किया हो क्योंकि चीजें जितनी नामुमकिन होती हैं वो उतनी ही मुमकिन भी होती है ना मगर कौन जाने